सी जिंदगी उसकी होती है छोटा सा घर उसका होता है छोटा सा दायरा उसका होता है उसकी चाहतें ख्वाहिशात ज़रूरियात महदूद होती हैं उसकी जिस्मानी सलाहियत ताकत की बजाय कमजोरी की तरफ होती है वह हर मामले में माँ बाप पर डिपेंडेंट होता है मुनासिब होता है खाना पीना लिबास या इसी तरह से दवाई या स्कूल या और दूसरे खर्च ये माँ बाप पर होते हैं ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि इसकी जरूरतों को पूरा करें उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है इसलिए कि उसकी सोच भी महसूस होती है वो दुनिया को डिस्कवर कर रहा होता है अपने अतराफ के एक महदूद दायरे में वो जी रहा होता है लेकिन जैसे जैसे जवानी की उम्र में वो पहुंचता है बारिश होता है उसके जिस्म में तब्दीली होती है और जिसमानी तब्दीली के साथ साथ उसकी सोच में भी एक तब्दीली पैदा होती है उसकी ख्वाहिशात और चाहतों की लिस्ट में इजाफा होता है उसका दायरा सोचने का हाल से बढ़कर मुस्तबल को भी अपने अंदर शामिल कर लेता है बचपन में इतना फ्यूचर के बारे में वो नहीं सोचता है लेकिन जवानी में जब आता है तो फिर अपने हाल के साथ साथ अपने मुस्तबल के बारे में भी सोचने की ताकत उसमें पैदा होती है शलायत उसमें पैदा होती है और मुख्तलिफ चीज़ें जो सिर्फ मिठाई और खाना और छोटी छोटी कपड़े और जूते दुनिया की छोटी चीज़ों से बढ़कर वो आगे भी सोचने लगता है उसके सामने माल की अहमियत आती है कि माल जिंदगी में होना जरूरी है ऐसा आना चाहिए पैसा मेरे हाथ में होना चाहिए बचपन बचपन में अगर बच्चों को पैसे से मिल जाए तो माँ बाप को ला कर देते हैं वो जानते हैं हमारे काम की चीजें माँ बाप हमारे लिए जो चाहे करते हैं अब इनके दिल में चाह पैदा होती पैसा मेरे हाथ में होना चाहिए मेरे दोस्तों के पास है फुला के पास है ये चीज मुझको चाहिए वो चीज चाहिए अब वो माँ बाप के इंतखाब पर डिपेंडेंट नहीं होता है कि जो मेरे लिए फैसला करेंगे जो लाएंगे मैं खाऊंगा जो पहनाएंगे पहनूंगा नहीं अब उसके अंदर ये पैदा होता है ये जज्बा पैदा होता है कि मेरे कपड़े मैं चुनूंगा मैं अपने लिए खुद इंतखाब करूंगा मेरे पास पैसा होना चाहिए मुझे जो चाहिए मैं लूंगा दूसरा मेरे लिए क्यों खरीदे दूसरा मेरे लिए क्यों खरीदे दूसरा मेरे लिए क्यों इंतखाब करे मेरा इंतखाब मैं करूंगा पैसे की अहमियत उसको आती है इसी तरह से उसके जहन में लोगों के दरमियान नुमाया होने का जज्बा पैदा होता है यूं ही आईने के सामने खड़ा नहीं होता है बचपन में करता था नहीं बचपन में नहलाने के लिए माँ को कई बार मनाना पड़ता है और उसको पकड़ के लाना पड़ता है लेकिन जब जवान होता है तो फिर उसका हाल क्या होता है उसके कपड़े उसका चेहरा मुंह धोना हाथ धोना कपड़े अच्छे पहनना कंगी दस बार करना एकदम अच्छा लिबास साफ सुथरा रहना वो आप शुरू करता है उसके अंदर अपने बारे में एहसास पैदा होता है अपनी इमेज के बारे में उसके अंदर एक किस्म का एहसास पैदा हो जाता है वो लोगों के सामने अच्छा दिखना चाहता है वो लोगों में उठता बैठता है तो उसके अंदर अपनी इज्जत नफ्स का एहसास भी पैदा होता है शोहरत इज्जत की चार उसमें पैदा होती है उसको कोई कुछ भी बोल दे बचपन में डांट दे सुन लेता है जवानी में डांट के देखो बाप डांट के देख दे बाप उसको अगर डांटता है तो बाप की भी नहीं मानता है उसके अंदर एक किस्म का ईगो पैदा हो जाता है वो अपने आप को भी कुछ समझने लगता है उसके अंदर अपनी इज्जत का एहसास पैदा होता है माल की अहमियत उसकी निगाह में आती है इज्जत की अहमियत उसकी निगाह में आती है फिर ये उम्र ऐसी होती है कि जो कि जिसम में तब्दीली आती है अब वो बच्चा नहीं रहा अब वो बालिग हो गया है अब उसके अंदर शहवत पैदा होती है अब वो जोड़ा ढूंढने लगता है माँ बाप ढूंढे या ना ढूंढे चार तो उसके दिल में पैदा होती है मेरी बीवी हो मेरा घर हो तो अब उसके अंदर वो जरूरत पैदा होती है जो बचपन में नहीं थी और एक फितरी चीज़ है हर एक में चीज़ पैदा होती है इसकी चार गलत नहीं है हाँ रास्ता लोग इस्तेमाल करते हैं जो गलत वो गलत है अब इसके अंदर सहमतें पैदा होती है वो अपने लिए अपने शरीर के हयात की तलब में हमेशा कोशा रहता है सुबह शाम उसके जहन में होता है जो बार बार बनना सवरना होता है उसकी वजह भी बुनियादी तौर पर उमूमन ये होती है इसी तरह से आप देखेंगे उसके दिल में एम्बिशन पैदा होता है मेरे सामने इतने साल में इतने साल में मैं इतने कमाऊंगा कंपनी खुला कंपनी में जॉब करूंगा आगे बढ़ूंगा इतनी तरक्की करूंगा खुला अहदे पर पहुंचूंगा डॉक्टर बनना ये बनना वो बनना एम्बिशन उसके जहन में पैदा होता है वो अहदा चाहता है ये चारों चीजें आप देखेंगे यही इंसान की जिंदगी को गवन करते हैं उमूमन और उसके अलावा भी चीजें हैं गलत है वो भी चीजें हैं लेकिन ये चार चीजें उमूमन इंसान को बिगाड़ने वाली होती है अगर ये चारों चीजें खराब नहीं लेकिन इनका जुनून इंसान को इंसान के जहन को बिगाड़ देता है उसके तवाजुन को दुनिया और आदत के मामले में अल्लाह और मखलूक के मामले में उसके बैलेंस को खराब करता है क्या चीजें हो माल शोहर और औदा ये चार चीजें के हमेशा इसको याद रखिए उमूमन इंसान के बिगाड़ का सबब ये चार चीजें होती है औरत की वजह से बिगड़ता है माल की वजह से बिगड़ता है औहदे की वजह से बिगड़ता है और शोहरत तलबी उसके अंदर आ जाए उसकी वजह से उसका दिल ही बिगड़ जाता है तो ये नौजवानी की उम्र में एक हद तक ये चीज़ें इंसान के जहन में पैदा होती हैं और फी नफसी ही ये बुरा नहीं है एक आदमी दुनिया में दुनिया के मामले में कुछ करें और उससे वो मकाम पाए इसमें कोई बुराई नहीं हाँ ये आदमी अगर दीन का काम करके नमाज पढ़ के अगर इज्जत पाना चाहता है ये चाह ये गलत है अल्लाह की इबादत के जरिए से मखलूक के दिलों में मकाम बनाने की कोशिश करना यह गलत है क्योंकि अल्लाह के लिए होना चाहिए लेकिन आपने कुछ अच्छा बनाता है और फिर लोगों के अंदर वो चीज़ आम करता है वो दुनियावी चीज़ है बाइसिकल उसने नहीं बनाई मोटर कार उसने बनाई नया फ्रिज बनाया उसने टेक्नोलॉजी में और वो चाहता है उसकी पब्लिसिटी भी कर रहा है गलत है नहीं ये दुनिया है ये इबादत नहीं है ये दुनिया का काम है और दुनिया की चीज है इसमें अगर वो चाहता है कि सारी दुनिया में आम हो जाए ताकि लोग उसको पहचाने से बुरा नहीं है आदाब के जरिए नहीं दीन के जरिए नहीं वो अल्लाह के लिए है वो अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए खास है इसको याद रखें तो ये सारी चीजें फी नफसी ही बुरी नहीं है लेकिन इनमें गुलू इंसान को बिगाड़ देता है और ये पहली ईंट होती है जो जवानी की उम्र में रखी जाती है बुनियादी ईंट यहाँ से अगर बिगाड़ शुरू हो जाए पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है लेकिन यहां इस उम्र में अगर इंसान की सोच सही हो और सही बुनियादों पर उसकी जिंदगी की इमारत की तामीर हो तो फिर बाकी जिंदगी भी सही गुजरती है कितने लोग आज पछताते हैं अब मालूम पड़ा और पलट के जब पीछे देखते हैं तो उन्हें अपनी गलतियों का एक पहाड़ दिखाई देता है मैंने जवानी में ऐसा नहीं करना चाहिए था मैंने ये नहीं करना चाहिए था ये करना चाहिए था माजी में जब वो झांकते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि मैंने जवानी में बहुत सारी गलतियां की लिहाजा आज इस उम्र में उसका नुकसान उसको भुगतना पड़ रहा है अगर हम चाहते हैं देखिए जिनकी गई हो तो गई उनके पास माजी में गौर करके रोने की बजाय बचा हुआ हाल तो कम से कम है ये उन लोगों से बेहतर है जो दुनिया से चले गए और तौबा नहीं कर पाए एक आदमी देखे क्या मैंने इतना सब कुछ वेस्ट किया ठीक है तूने वो वेस्ट किया अब ये सोचने में अभी का भी वेस्ट मत कर अचानक मौत आ गई तो इसलाह का वक्त उसको नहीं मिलेगा कम से कम तू उससे तो अच्छा है कि जिसको मौका ही नहीं मिला मरने तक वो गफलत में पड़ा रहा मरने तक वो गुनाहों में पड़ा रहा मरने तक उसने अपनी जिंदगी गलत पर ही गुजार दी तो उससे तो अच्छा है लिहाजा जिसकी उम्र चली गई जवानी की वो सोचे कि ये दर्द मेरे क्या काम का मिसाली नौजवान कैसा होता है जवानी की उम्र में आदमी को कैसा होना चाहिए कौन से नौजवान अच्छे हैं अब वो सोचेंगे हम, हम लोगों के लिए इसमें क्या है हम लोगों के लिए इसमें ये है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र चली गई उनके लिए है कि हमारे घर में हमारी औलाद हमारी बस्तियों के नौजवान कौम के नौजवान इन लोगों के बारे में उन्हें कम से कम मालूम हो कि ठीक है हमारी तो गई हमारी जिंदगी गई हमारी उम्र चली गई लेकिन हमारी जो कौम है हमारा जो समाज है इनके इस समाज के नौजवानों के लिए हम रहबरी दे सकते हैं हमें मालूम हो कि नौजवान कैसा होना चाहिए उसमें क्या चीजें होना अच्छे नौजवान कैसे होते हैं और उनके क्या अवकाश होते हैं किन चीज़ों पर उनको ध्यान देना चाहिए क्योंकि दीन बहुत वसी है दीन के शौबे बहुत ज़्यादा हैं सिर्फ ईमान ही की सत्तर के करीब चाहते हैं आप सोचिए कितने अहकाम हैं शरीयत के कितने यानी दीन के मैदान है जिसमें आपकी दीन पर चलता है इबादत अखलाक मामलात और अकायद और जितने भी अहकाम हैं बहुत कुछ है लेकिन वो क्या बुनियादी बातें हैं जो एक नौजवान को जिन पर ध्यान देना चाहिए अपनी जिंदगी में इन चीजों को पकड़ के चलना चाहिए अगर किसी की जवानी चली भी गई है तो गम की बात नहीं है वो दूसरों के लिए रहकर बन सकता है तो नौजवानी की जो उम्र है ये फितने की उम्र है ये फितने का दौर है आजमाइश का दौर है और बाद अवकात इसमें इंसान से ऐसी गलती हो जाती है कि जो जिंदगी भर उसके लिए मुसीबत बन जाती है आपने देखा होगा नौजवानी की उम्र में इंसान का कदम फिसल गया लड़की के मामले में जिंदगी भर उसके गले में रहती है नहीं चाहता है वक्ती तौर पर गलती की लेकिन अब उसके साथ जोड़ दिया पूरे समाज ने उसको अब वो लड़की उसकी पसंद की नहीं है ना अखलाक उसके अच्छे हैं ना कुछ अच्छे हैं लेकिन अब पूरे समाज में उसकी गलती मालूम पड़ गई आप दोनों का पेड़ था पकड़ के उसके माँ बाप ने इसके गले में थोंक दिया जिंदगी भर उसको भुगतते रहो ऐसी कितनी गलतियां इंसान से मिलती हैं कभी औरत के मामले में कभी किसी और मामले में कभी माल के सिलसिले में जुए की आदत लगी बड़ा बड़, बड़ा माल उसने समाया उसने सब उसने खपा दिया या कोई लत लग गई शराब की दोस्तों के साथ और इतनी शराब पी कभी ड्रग एडिक्ट हो जाता है इस उम्र में दो वर्ष कुछ नहीं है टेंशन है ना देख मेरा टेंशन इससे ज्यादा है ये ले पी शराब पिला दी या नशे की कोई और चीज पिला दी जिसका एडिक्शन उसको हो गया पूरी जिंदगी खत्म पूरी जिंदगी बर्बाद आप देखिए कुछ दो चार सालों पहले बम्बई के अंदर एक ड्रग बहुत आम हो गई और कई लोगों की मौतें उसमें हो गई तीन से छह महीने के अंदर आदमी की हड्डियां पिघला देती थी कितने नौजवान हजार दो हजार तीन हजार मालूम नहीं कितने उसके अंदर मर गए तीन तीन महीने के अंदर आदमी मर जाता था हड्डियां खत्म खून निकलना शुरू आंख से जबान मुंह से और मर जाता था ये उम्र बहुत वल्नरेबल उम्र है इसमें इंसान के जज्बात चाहते तमन्नाएं लज्जत की तलब उसकी अकल पर भारी हो इसमें आदमी सोच समझ के फैसले नहीं करता है इसमें आदमी जज्बात में आके फैसले करता है और फिर भुगतता है चाहे वो जज्बात गुस्से के हों गुस्से में आके मारपीट कर ली जेल में गया पुलिस ने रखा इतने साल तक हाथ से कतल हो गया तो और भी बड़ा जज्बात में आके मुसलमानों के हालात देख के दुनिया में क्या कर रहे हैं गुस्सा आ गया न्यूज में देखा व्हाट्सएप पे देखा फेसबुक पे देखा जज्बात में आ गया जाके कुछ गलती कर दी अब पुलिस ने पकड़ लिया डाल दिया जेल के अंदर अब सालों साल निकल गए जवानी की उम्र खत्म हो गई और कई साल दस साल बारह साल के बाद में फिर जेल में से बाहर आ रहा है जिंदगी का असल हिस्सा चला गया उसका कितने केसेस हैं आप देखिए जवानी की उम्र में बेहयाई की आदत पड़ गई और उसके बाद बदकारी करने लग गया बीमारी लग गई एड्स की बीमारी हो गई या कोई और बीमारी हो गई आप देखिए जिंदगी का एक यानी हिस्सा उसको गलत गुजारने से जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम शुरू हो गया ऐसे कई मामला है जिनमें इंसान गलती करता है दीन एतबार से दुनिया एतबार से अखलाकी एतबार से खानदानी एतबार से लिहाजा ये बहुत अहम उम्र है इसमें इंसान को चाहिए कि वो सोच समझ कर फैसले लिए और खास तौर से समाज के बड़ों की बड़ी जिम्मेदारी है छोटों की जिम्मेदारी छोटी है तो बड़ों की जिम्मेदारी बड़ी अगर छोटों की बड़ी जिम्मेदारी तो बड़ों की उससे बड़ी है समाज की जो तजुर्बाकार लोग हैं समाज के जो बुजुर्ग हैं इनकी अहमियत समाज के लिए बहुत बढ़ जाती है खास तौर पर इस एतबार से कि वो नौजवानों को अपने तजर्बे के जरिए से भटकने से बचाते हैं अल्लाह ताला सारे लोगों की उम्र एक जैसी रखता अगर भटकते तो सब भटक जाते हैं सोचिए इसको सारे नौजवान सबके गलत पैसे सबके सब गए के पीछे लेकिन उम्रों का फर्क कोई पहले पैदा हुआ कोई बाद में इसका फायदा क्या होता है कि जो समाज के बुजुर्ग होते हैं जो पहले दुनिया में आए वो सीख लेते हैं ठोकरे खा लेते हैं समझ लेते हैं दुनिया देख लेते हैं बाद में आने वालों के लिए ये अपने तजर्बे और एक्सपीरियंस के जरिए से रहबर बनते हैं ये एक फायदा है इस चीज का लिहाजा नौजवानी की उम्र का खास ख्याल रखना जरूरी है नौजवानों को भी और कौम के बड़ों को भी बुजुर्गों को भी आइए देखते हैं सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बतलाया कुरान करीम में और अहादीस में क्या बातें आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी की उम्र के बारे में बतलाया कि क़ियामत के सवालों में एक सवाल ये भी है कि जवानी की उम्र को कहाँ कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तज़ूल क़दम इब्न आदम यौम अल-क़ियामह मिन 'इंद रब्बिह हत्ता युसअल 'अन इब्ने आदम के कदम क़यामत के दिन अपने रब के आगे से हट नहीं पाएंगे यहाँ तक कि उससे पांच चीजों के बारे में मुहासबा सवाल न कर लिया जाए क्या चीजें हो पांच अनुमरी उम्र अपना अपनी उम्र किस चीज में बना की उम्र को अपनी जिंदगी के टाइम को किन कामों में खपाया वान शबाब ही फीमा अबला और उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि जवानी को किन कामों में खर्च किया किन चीजों में अपनी जवानी की कुतों को खपाया माल ही मिन अन तब वो फीमा अनफाका हो उसके माल के बारे में दो सवाल एक कहाँ से माल कमाया हलाल जरिए से या हराम से और कहाँ पर खर्च किया ख्वाहिशात में या अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक उमा कामिल अपनी मालिम और पांचवा सवाल ये कि जो कुछ जानता था उस पर कितना अमल किया जो भी तेरी मालूम थी किसी की कम है किसी की ज्यादा है इस एतबार से मालूम होता है कि इंसान की मालूम उस पर हजत है जैसा इल्म इंसान का है जैसी अकल और सलाहियत इंसान की है उसी के मुताबिक वो अल्लाह ताला के अहकाम का मुकलफ है इल्म और अमल की सलाहियत के एतबार से इस्तेमाल होगा तो जो कुछ भी वो जानता था उस पर कितना अमल किया ये पांच सवाल हैं जो हर एक से पूछे जाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि चार बुनियादी नेमतें चार बुनियादी नेमतें इंसान के ऊपर अल्लाह की हैं और इन चार नेमतों के बारे में क़ियामत के दिन महातबा होगा नंबर एक वक्त उम्र ही उम्र यानी वक्त है वक्त एक नेमत है उसके बारे में हिसाब फिर सेहत जवानी में होती है जवानी की उम्र में इंसान जिस्मानी तबार से कवी होता है और इसमें इंसान ख्वाहिशात का गलबा पर होता है तो जिस्मानी तबार से सलाह भी इसमें होती है इस उम्र में उसने क्या किया यहाँ की कुतों को कहाँ लगाया अलशबाब ही थी मामला तो दूसरी चीज मिली सेहत या कुत ताकत जिस्मानी सलाहियत नंबर तीन माल माल भी नियमत है इसके बारे में भी पूछ होगी कहाँ से कमाया कहाँ खर्च किया और नंबर चार इल्म इल्म के मुताबिक कितना अमल है तो वक्त सेहत मान और इल्म इन चार चीज़ों के बारे में पांच सवाल क़यामत के दिन होने वाले हैं लिहाजा इंसान को चाहिए कि इन चारों नेमतों का सही इस्तेमाल करे और कहा अदा करे तो आप गौर करें कि इसमें एक सवाल पांच सवालों में से एक ये भी है कि जवानी की कुतों को कहाँ तर्क किया अगर से पूरी उम्र के बारे में सवाल है लेकिन खास तौर से एक उम्र कौन सी है जवानी की उसके बारे में एक सवाल था पूरी जिंदगी में से एक हिस्से के बारे में और एक सवाल है पूरी जिंदगी का तो सवाल है ही है लेकिन खास तौर से जवानी के बारे में भी सवाल है क्यों इससे कि बुढ़ापे में सिर्फ वक्त होता है जवानी में वक्त और सेहत दोनों होती है तो ये खास जमाना इंसान की जिंदगी का जिसमें इंसान का वक्त और सलाहियत क्योंकि बुढ़ापे में तो आपके ये पास टाइम ही टाइम है लेकिन बहुत सारी चीजें आज नहीं कर सकता है लेकिन जवानी में आदमी चाहे तो कर भी सकता है क्यों इसलिए कि उसके पास जिंदगी पड़ी है और उसी के साथ साथ सलाहियत भी जिसमानी एतबार में है लिहाजा इस इस उम्र की कदर करना जरूरी है इमाम तिमिदी ने यह हदीस नकल की जो मैंने अभी बयान की और यह अपन दर्जे की रिवायत है आइए देखते हैं जवानी के बारे में हमको किन चीजों का एहसास या किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए नंबर एक आपने देखा अभी कि एक आदमी जवानी की कदर करे जवानी की कदर करे इस उम्र को अहम जाने एक आदमी जिसके पास उसकी जेब में एक लाख रुपया हो वो आदमी सोचता है कि एक चोरी नहीं होना चाहिए एक आदमी उसकी कदर उसके दिल में होती है तो खोने का डर भी होता है लेकिन जिस चीज की कदर नहीं होती है उसके खोने का आदमी को डर नहीं होता है लिहाजा आदमी जवानी की कदर करे इसको अपने मुस्तबल में झांकने में खत्म मत कर खत्म नहीं करे आगे करना ये चाहिए वो चाहिए आदमी की उम्र वो निकल जाती है आज मुझको क्या करना है ये उम्र मेरी कितनी कीमती है इस उम्र में मेरी जिम्मेदारियां क्या है आदमी इसको दीन एतबार से देखे मेरी इस उम्र में मेरी जिम्मेदारियां क्या है आदमी इसको देखे तो ये एक चीज याद रखें जवानी की कद्र करना नंबर दो अब यहां से हम शुरू करते हैं क्या क्या चीजें इंसान को जवानी की उम्र में करना चाहिए पहली चीज इस उम्र को जाय करने से डरना और इसकी कदर करना नंबर दो इस उम्र में इंसान के पास सही अकीदा और सही मनहज होना चाहिए अगर उसका अकीदा सही नहीं हो और उसका मनहज सही नहीं हो तो वो ऐसे फैसले करेगा जिसको आगे की जिंदगी में उसको भुगतना पड़ेगा लिहाजा इस उम्र में आदमी को दीन सीख लेना चाहिए दीन में मिसाली नौजवान कौन है जो गलत अकीदे पर हो नहीं जो बातिल मनहज पर हो नहीं आज कितने लोग मनहज के बिगाड़ की वजह से गलती पर गलती की और उसके बाद जेलों में चले गए आज आप देखिए दाइश वगैरह में नौजवान ही अमूमन दीन का जज्बा है लेकिन क्या है मनहज गलत है आप देखिए उनकी वजह से न सिर्फ उनकी जिंदगियों को नुकसान हुआ मुसलमानों को और इस्लाम को नुकसान हुआ इस्लाम की तस्वीर बिगड़ी और मुसलमानों को आलमी सतह पर उसका नुकसान भुगतना पड़ा तो मनहज का बिगाड़ न सिर्फ ये कि उनकी अपनी जात को उसका नुकसान होता है बल्कि इसका नुकसान नौजवान क्योंकि करने की पोजीशन में होते हैं बूढ़ा आदमी अगर उसका अकीदा बिगड़ता है या उसका मन बिगड़ता है कुछ होता है वो अपने दायरे में कुछ ना कुछ करता है बस बोलने की हद तक उसका मामला होता है नौजवान जब बिगड़ता है तो नौजवान की खसूसियत ये है कि उसकी जिंदगी में एक्टिविटी भी होती है जब वो किसी चीज को सही समझता है उसके लिए कुछ करता है उसको गलत समझता है उस गलत को फैलाता है उस गलत के लिए लड़ता है उसके लिए खड़ा होता है लिहाजा ये उम्र बहुत अहम है इसमें अगर बिगाड़ जिंदगी में आ गया तो बिगाड़ उसकी अपनी जात तक या उसके अपने दायरे में महदूद नहीं होता है उसके जहन में जो ताकत होती है ये कि वो सब तक उसको फैलाते हैं इसीलिए आप देखिए जितने इलाकों में दीन आम होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आप देखिए नौजवान से जिन्होंने दीन के लिए तकलीफ बर्दाश्त करके दीन को आम किया नौजवान की उम्र लड़ने वाली होती है बूढ़ा आदमी सोचता है अब अगर मैं ऐसा कहूँगा तो फुलाने के यहाँ बेटी दीवी है और फुलानी चौपाल में मेरी बैठक है और मेरा रेपुटेशन ऐसा है अगर मैं अचानक एक नई बात मान लूंगा तो मेरी जिंदगी में समाज में मेरा मकाम नहीं रहेगा ये जो कंसिडरेशन है ये बुढ़ापे में होता है जवानी में नहीं होता है जो होगा देखेंगे जवानी ऐसी होती है तो आदमी जवानी की उम्र में जो फैसले करता है वो रिस्क लेने वाले होते हैं बुढ़ापे में आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता रिस्क नहीं जवानी में जो होगा देखेंगे अभी उम्र बड़ी है हुआ भी कुछ गलत तो रिपेयर कर लेंगे बुढ़ापे में तो नहीं अपने पास टाइम कितना बचा हुआ भाई आप एंड में जाके कोई गलती में नहीं करना चाहता हूँ जो कुछ बचा हुआ है मेरा मकान समाज में उसको भी खोना नहीं चाहता हूँ जवानी में नहीं होता है लोग कुछ भी कहें कुछ नहीं होता है जवानी ऐसी लिहाजा जवानी की उम्र में अगर इंसान का मनहज बिगड़ जाए तो इसका नुकसान सिर्फ नौजवान खुद नहीं उठाते हैं बल्कि इनकी कोशिशों के जरिए से पूरे समाज को इसका नुकसान होता है खास करके अगर मनहजी बिगाड़ सियासी मामला में हो पूरे मुल्क का हाल देखिए पूरी दुनिया का हाल देखिए मुल्क के मुल्क खराब हो रहे हैं हुकूमतों की हुकूमतें उजड़ रही हैं मुसलमानों की जान माल इज्जत और हर चीज का नुकसान हो रहा है किस बुनियाद पर इसमें तोड़फोड़ करने वाले कौन हैं चाहे मुसलमान हो कोई भी हो किसी भी कौम के हों आप देखिए नौजवान इसमें आगे होता है तो ये उम्र बहुत ही भयानक उम्र है इस एतबार से कि बिगाड़ आए तो बहुत खतरनाक आएगा खासतौर से अगर वो बिगाड़ सियासी हो लिहाजा मन है सही होना आदमी का अकीदा और उसकी ज़िंदगी के उसूल सही होने चाहिए इस सिलसिले में आप देखें अल्लाह ताला ने एक मिसाल कुरान करीम में दी असहाब कहत की ये नौजवान थे इनके बारे में अल्लाह ने फरमाया आओ तुम्हें हम हक के साथ उनका किस्सा बयान करते हैं नौजवान जो असहाब कहत सूर्य में आप उनकी तफसीर पढ़ सकते हैं अल्लाह ने फरमाया इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वजिदनाहुम हुदा ये कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत मजीद बढ़ा दी ईमान अगर आदमी अपने ईमान को सही कर ले तो अल्लाह ताला इस ईमान की बुनियाद पर इस ईमान की कुत की बुनियाद पर इंसान को और हिदायत देता है खैर खैर खींचती है शर शर को घसीटता है इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वजिदनाहुम हुदा ये कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत को मजीद बढ़ा दिया वरबतना अला कुलूबिहिम इद कामू जब वो दावत देने के लिए खड़े हो गए या जब उन्होंने हक को इख्तियार किया और हक के लिए कायम हो गए हक के लिए खड़े हो गए उस पर डटे रहे तो हमने उनके दिलों में सबाब पैदा किया वरबत दिलों में सुकून इतमान और साबित कदमी पैदा की जब उन्होंने अपने दीन पर इस्तकामत इख्तियार की तो हमने उनके दिलों को और जमा किया इस्तकामत मजीद इस्तकामत के दरवाजे खोलती है सब्र मजीद सब्र का दरवाजा खोलता है फ़ात रब गुना रब उस समावात कब खड़े हुए बाज़ ने कहा उस दौर के इसकी तफसील हम कभी और देखेंगे आज क्योंकि उनवान वो नहीं है वक्त का जो बादशाह था या कौम उसके सामने वो खड़े हुए और उन्होंने दावत दी तो हुई ये कौम शिल्प पर कायम थी गुमराही पर अल्लाह ताला ने इनको हक समझने की तौफीक दी ये खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने कहा क्या कहा फ़काल रब्बुना गुना रब वल अर्द हमारा रब हमारा रब वो है जो आसमान और जमीन का रब है फिरौन की तरह नहीं वकाल अन रब्बुकुम आला हमारा मालिक हमारा रब कौन है हमारा रब ये बादशाह नहीं है हाँ हमारा रब बुद्ध नहीं है बल्कि हमारा रब कौन है अल्लाह है वो अल्लाह जो आसमान और जमीन का रब है सारी कायनात का रब है लन नदू मिंदून ही हम उसके सिवा किसी और नाबूद को नहीं पुकार सकते और नहीं पुकारेंगे लन लन कभी नहीं नेवर हम अल्लाह के सिवा किसी और नाबूद को पुकारेंगे नहीं कभी नहीं पुकारेंगे पुकार ही नहीं सकते हमसे इसकी उम्मीद ही मत रखो हम कभी अल्लाह के सिवा किसी और नाबूद को नहीं पुकारेंगे लकद कुलना इदन शत अगर हम अल्लाह के सिवा किसी और महबूद का इकरार करें किसी और को महबूद माने तो ये हमारा बोल ये हमारा जुमला ये हमारा कौल क्या होगा हद से बड़ी हुई बुराई होगी जुल्म होगा एक भयानक गुना और घटिया चीज होगी ये ऐसा जुमला होगा जो कुफर में बढ़ा हुआ होगा पहले दर्जे का कुफर होगा अगर हम अल्लाह के सिवा किसी और को भी महबूद मानते हैं हम ऐसी बात अपनी जुबान से नहीं बोल सकते क्या हाँ, अल्लाह के सिवा भी और माबूद है नहीं बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे हम हिम्मत और हौसला और हा उला रहा और ये जो हमारी कौम है इन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद घड़ लिए अल्लाह के सिवा इन्होंने औरों को माबूद बना लिया है लौला ये कोई खोली दलील इस मामले में क्यों नहीं ले आते ये जब कहते हैं कि अल्लाह के सिवा महबूद है हम तो नहीं मानेंगे इनका कहना है कि अल्लाह के सिवा महबूद है तो फिर दलील ले आए ऐसी दलील ले आए कि जो बिल्कुल वाद दलील लौला यातून अलैहिम बिसुल्तान बय्यिन ये कोई खुली दलील क्यों नहीं ले आते फमन अगलम मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाह कदिबा उससे बढ़ के और कौन जालिम होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ खड़े जवानी की उम्र डेरिंग वाली होती है ये कौम के अंदर खड़े हुए बादशाह के सामने खुल खुल के दावत की हम किसी और को नाबूद मानने वाले नहीं अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अल्लाह ताला के खिलाफ बहुत ही घिनौना कुफर करने का इरतकाब करेंगे और कौन कह रही है हम कौम के रस्ते पे नहीं चल सकते जवानी में होता है बुढ़ापे में उम्र है तो वही सब कर रहे हैं अपने को बेसी करना चाहिए जवानी में नहीं होता है जवानी में होता है कि ये सही है जो भी होगा देखेंगे मैं तैयार हूँ इसके लिए जवानी में हौसला हिम्मत होती है बुढ़ापा अक्ल गालिब होती है जवानी हिम्मत गालिब होती है हौसला गालिब होता है ये फर्क होता है तो उनको जब हक समझ में आ गया अब अगर देखिए सही बात समझ में आ गई हौसला अगर है जवानी में एकदम ये काम चला देगा और दावत आम कर देगा लेकिन अगर यही चीज गलत उस तक पहुंच गई उसका अकीदा बिगड़ गया उसका मनहज बिगड़ गया इस उम्र के अंदर तो फिर ये उम्र क्या हो जाएगी इसके लिए शर के फैलाने का जरिया बन जाएगा लेकिन इन नौजवानों को आप देखिए कि बादशाह मुखालिफ है कौम मुखालिफ है और सारी कौम शिर पर कायम है हुकूमत भी इसी पर कायम है और बादशाह सामने खड़ा कर दिया गया बोलो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना बोलो बोलते लोग सुनो अल्लाह के जो कभी इबादत नहीं करेंगे किसी की और कौम बोल रही है तो हम कौम के पीछे चलने वालों में चलिए आप बंद करके अगर ये दलील लाते हैं तो मानेंगे नहीं तो नहीं मानते हैं। और अल्लाह पर जोड़ बांधना अल्लाह के जो कोई माहौल नहीं है अगर कोई आप मानता है तो ये जुल्म है अल्लाह पर झूठ है हमारा रब कौन है आसमान और जमीन का रब जो उसका रब है आसमान और जमीन का वही हमारा रब है ये तुम्हारे महबूद आसमान और जमीन के रब है नहीं है तो फिर उनको क्यों रब बनाया तुमने ताकत दलील की ताकत पुख्तगी अकीदे की कि हम शिर नहीं करेंगे मिसाली नौजवान के अलामत में से एक अलामत ये है एक नौजवान के बारे में आप कहें कि अच्छा है उसकी शुरुआत कहां से होती है बहुत खूबसूरत है बहुत ज्यादा कमाता है बहुत पढ़ा लिखा है हमारे यहाँ तो लड़की देखने में यही देखते हैं दिन बाद में सीख लेगा भाई हमारी बेटी सिखा देगी उसको अच्छी बात रिश्ता देखते हैं तो क्या करते हैं लड़का पहला सवाल करता क्या है अगर कोई कहे नमाज पढ़ता है रोजा रखता है हाँ दीनी मजालिस में जाता है वो सब ठीक है लेकिन वो काम क्या करता है बताओ अच्छी बात डॉक्टर है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है फुलाना डॉक्टर है लेकिन नमाज नमाज पढ़ने को क्या लगता है आप बता देंगे उसको इंशाल्लाह आज ही तो कल पढ़ेगा दाढ़ी नहीं है, है? दाढ़ी उठती है आज ही तो कल निकाह हो जाएगा बेटी बताएगी रख ले हम इस तरह से मान लेते हैं लड़की लड़के के लिए कैसा है जब नौजवान लड़की भी तो है ना लड़की कैसी है लड़की दीनदार है लड़की खिदमत करने वाली है घर वालों की खिदमत करती है कामकाज करती है पर्दा करती है तो सब ठीक है देखने में कैसी है थोड़ा सा रंग कैसा है दिन की तरह नहीं रात की तरह है थोड़ा सा सामने रंग नहीं चली क्यों हमारा बेटा कैसा है बहुत खूबसूरत है और पढ़ा लिखा है और बहुत कमाता है तो बीवी उसकी तरह होना चाहिए कोई बुरी बात नहीं है लेकिन आप दीन को न देखें और कोई खूबसूरत मिल गई अच्छे घर की है यानी दीनदार नहीं पैसे वाला सियासतदान है और बहुत पढ़ी हुई है और खूबसूरत है लेकिन पर्दा नहीं करती और एक बात आप बोले तो जवाब में दो गोलियां मारती है हाँ बोलने में ऐसी है कि आप सवाल पूरा नहीं किए जवाब तैयार है उसके पास और बची बातें व्हाट्सएप पे भी भेजेगी ये हाल है वो चल जाएगा आज नहीं तो कल देखो भाई बच्चा आ जाएगा घर में सब जिम्मेदारी आएगी घर गृहस्थी आ जाएगी सही हो जाएगी वो तजुर्बा आएगा अभी तो उम्र क्या होती है ये आज हमारे समाज का हाल है दीन हमारे यहाँ असल नहीं है अकीदा हमारे यहाँ असल नहीं है हम अपनी बच्चियों को ऐसे घरों में दे देते हैं जो शिरक और बिदात पर कायम हो क्यों इसलिए कि हम दुनियादार हैं बातों में हम दीनदार हैं जिंदगी में हम दुनियादार हैं लिहाजा हम दीन को दीन को हम सबसे कुछ डालते हैं दीन हमारे लिए छठी उंगली की तरह है उसका कोई फंक्शन नहीं है दिन हमारे लिए स्टेपनी की तरह है रहना चाहिए कहा पीछे गाड़ी में नहीं हमारे वो टायर वो पहिया जो है वो गाड़ी में नहीं है अगर गाड़ी पंक्चर हुई तो काम आएगा ये हमारे दिन का हाल है कैसे हम तरक्की करें पहली चीज देखने की नौजवान में सिर्फ रिश्ते के लिए नहीं हर एतबार कि नौजवान अच्छा बने अपनी औलाद को अच्छा बनाने के लिए पहले क्या करें हम बचपन से उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं बेटा क्या बनेगा इंजीनियर डॉक्टर फुलाना दिमागा हमारे बच्चे के जहन उसको कभी बताया बेटा क्या बनेगा मुसलमान बनूंगा अच्छा मुसलमान कभी बताए नहीं खुद नहीं अपने आप को बताया उसको क्या बताएंगे उसके जहन में डालें इसीलिए वो सब बन जाता है मुसलमान नहीं बनता वो सब बन जाता है मुसलमान क्योंकि आप कभी सिखाया नहीं हमारे ने तो कोई बताया नहीं कि बेटा तो बड़ा बन के अच्छा मुसलमान बनेगा और फिर डॉक्टर भी बनेगा फिर इंजीनियर बनेगा मुसलमान बनना तो सिखाया नहीं उसको हमने पहला काम ये पहला काम बच्चों की तरबियत से लेकर जवानी की उम्र में अकीदा सही हो इंसान की खूबी इंसान की भलाई आप देखिए नौजवानों की तारीफ कर रहा है अल्लाह ताला किस बुनियाद पर इनका सालाना पेशे बताया अल्लाह ने इनका अहदा बताया इनका इनका कितना कमाते थे बताया हैंडसम थे या नहीं अल्लाह ने बताया नहीं उनकी खूबी क्या बताई खड़े होकर कहा अल्लाह के साथ हम शिरक नहीं करेंगे हमारी कौम बगैर दलील की शिरक करती है दलील लाएंगे तो मानेंगे नहीं तो नहीं ये जो मजहबी पुख्तगी है अकीदे इसके हक तोहहीद और बिला दलील कोई चीज़ नहीं मानना ये मनहज आप देखिए इनके अंदर ही अल्लाह ने उसकी तारीफ नौजवान हमारा ऐसा होना वरना आप बन करके किसी भी पुकारने वाले के पीछे जाने वाले नौजवान अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं अपना फ्यूचर भी खराब करते हैं जिनकी मिजाज में दो चीजें अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं और किसी भी चीज को हम तस्लीम करेंगे दलील की बुनियाद पर आप देखिए अल्लाह ने ये दो चीजें यहाँ पे बयान की अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं हमारा अल्लाह हमारा महबूब अल्लाह रब्बुना वो है लन्नत दूरी ही हिलान किसी और की इबादत नहीं करेंगे किसी और को महबूब नहीं मानेंगे नंबर एक तोहहीद से खैर शुरू होती है सारी खैर तोहहीद से शुरू होती है सारा शर शिर से शुरू होता है अकीदे की सलाह करें अपने घरों में भी नौजवान बच्चे हैं नौजवान बच्चियां हैं कभी हमने उनको बिठा के कोई अकीदे की किताब पढ़ाई आप नहीं पढ़ा सकते ठीक है आपने कभी उनको कोई चीज दी थी देख अपना अकीदा सुन ले जरा ये भी दर सुन लिए बयान मौलाना का पढ़ ले किताब हम नहीं करते जरूरी नहीं करते लेकिन दुनिया का एजुकेशन आप देखिए कितनी सारी किताबें पढ़ रहा है आप देखिए 20 साल तक पढ़ता रहता है हम कभी दीनी तरबियत की फिक्र नहीं करते नंबर एक और नौजवान का अकीदत से अब नौजवानी में जाके अकीदत से करोगे तो उसका ये बचपन से करना चाहिए कि हमारी औलाद और जो नौजवान आज हमारे हैं सामने हैं हमारे इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को अगर अल्लाह के यहाँ अच्छा बनाना चाहते हैं तो पहला काम ये करें कि इस्लाम में जो अकीदा सिखाया गया है कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर उस अकीदे को अख्तियार करें साफ अपील और कड़ी मन ये पहला काम है नंबर तीन तीसरी चीज तपको और ओलमा की कहती है तपको का मतलब क्या है दीन की गहरी समझ लेकिन दीन की गहरी समझ अपने आप और अचानक नहीं आ जाती है बल्कि दीन की गहरी समझ आती है समझदारों के ताबे होने से और दुनिया के हर मैदान में आप देखिए ऐसा ही है एक एक नौजवान जब मेडिसिन की पढ़ाई करता है तो वो कुछ दिनों के लिए अपने इब्तदाई मरहले में एक बड़े डॉक्टर के अंदर में रहता है यहाँ तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर में कोई रहता है फुलाना मैकेनिक के अंडर में कोई रहता है एक आदमी किसी तजर्बाकार जानकार के ताबे होकर मातहत रहकर सीखता है सीखते सीखते सीखते बनता है फिर वो उसको छोड़ देता है अचानक दिखता है और कोई सीखता है तो क्या करता है जाति पानी में कूद देता है पानी में कूदता है नहीं बल्कि कोई तैरने वाला उसके आसपास होता है और ये उसके सामने तैरता है डूबता है निकलता है फिर होते होते होते उसको तैरना आता है उसको छोड़ देता है जिंदगी के तमाम ओलूम और फनून और सलाहितों में दीन में भी ऐसी है बल्कि इससे ज्यादा जरूरी है क्यों इसलिए कि इन चीजों में नुकसान दुनिया तक महदूद है लेकिन दीन के मामले में नुकसान उसका नुकसान दुनिया में भी होता है और दुनिया से गुजर के आखिरत में भी जाता है अगर अकीदा और मनत बिगड़ गया अगर अहकाम में बिगाड़ पैदा हो गया हलाल हराम में उसने गलती की दुनिया से बढ़ के उसका नुकसान आखिरत में भी होगा लिहाजा नौजवानों के लिए जरूरी है खसूस उन नौजवानों के लिए जो दीन का शौक रखते हैं इनके लिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है क्यों इसलिए कि दीन का गलत तस्वर अगर इनके जहन में आ गया तो ये गुमराही के फैलाने का जरिया बनेंगे और अगर वो तस्वुर सियासी हो और बिगाड़ वाला हो तो न सिर्फ इससे इनका अकीदा और आखरत बिगड़ेगी दुनिया में भी फसाद फैलाने का जरिया बनेंगे लिहाजा तीसरी चीज जरूरी है कि वो दीन की गहरी समझ हासिल करें कैसे ओलमा से जुड़े हैं कौन से ओलमा वो ओलमा जिनसे ऊपर मोतबर ओलमा ने उनको इजाजत दी ये भी नहीं कि हर आदमी अपनी पसंद के एतबार से लोगों को इख्तियार करे आज ये हो चुका है जैसा हम मॉल में जाते हैं और अपनी पसंद से देख के हम चीज़ें खरीदते हैं आज हम दीन के मामले में भी ऐसे हो गए हैं और ये नुकसान है। बोले तो इनकी बात बहुत अच्छी लगती क्यों बोले इंग्लिश में बोलते तो कैसे नहीं बोले मुश्किल नहीं बोलते थोड़ा इजी इजी वर्ड बोलते इनकी बात बहुत अच्छी लगती क्यों बहुत हंसाते इनकी बात बहुत अच्छी लगती दुनिया की मिसाल देती है बोले डेली एग्जाम्पल देते अपने को समझ में आता है क्या ये किसी के हक होने की दलील है हक होने की दलील क्या है कोई आदमी वाकिल सेब लिया जाए इसकी इसकी दलील या इसकी अलामत या बुनियाद क्या है कि उससे ऊपर अहल इल्म जो जिनका मोतबर होना मुसलम है जिनको दुनिया मान चुकी है मोतबर है उन्होंने अपने बाद इनके लिए इजाजत दी है हाँ इनसे इल्म सीखो दुनिया के सारे मामला में ऐसा होता है दीन में क्यों नहीं हाँ कोई आदमी अगर कहीं से कुछ पढ़ लिया आपको आके बता दिया और वो बात सही है चेक करने से मालूम है आप मानो उसको लेकिन क्या करेंगे आप उसको उस्ताद बनाएंगे अगर आप खुतबे में नहीं जा पाए जुमा के और आपके दस साल के बेटे ने जाके मौली साहब से खुतबा सुन लिया और आपको आके सही बता दिया कि मौली साहब आज ऐसा बोल रहे थे कुरान में ऐसा भी है आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना हो आपने मौली साहब से चेक किया उन्हें कहा हाँ ऐसा है सही है आप क्या करेंगे बेटे ने एक बात सही बताया तो उसको उस्ताद बना लेंगे अपना दस साल के बच्चे को आप किसी भी आदमी की एक बात सही निकलने से दो या दस बातें सही निकलने से सौ बातें सही निकलने से आप उसको सही मान लिए तो सौ बातों में से निन्यानवे बातें सही कहे और एक बहुत गलत बात कह दे जो अकीदे और मनहज का बिगाड़ जिसमें हो आपको जहनों में ले जाएगा जहाज के डूबने के लिए कितने सुराख चाहिए उसमें बाद होता ही तो तो सही तो बोलता है सही बोलता है लेकिन वो क्या गलत बोलेगा उसका मनहज गलत है उसका अकीदा गलत है वो माँ बाप के हकूक पे सही बोला वो बीवी के हकूक पे सही बोला वो औलाद की तरबियत पे सही बोला तिजारत में कैसा रहना चाहिए सही बताया उसने नमाज पढ़ना सही तो बताया रोजा रखना सही तो बताया ये ऐसी चीजें जो सभी मानते हैं अब उसने इसमें सही सही सही सही बातें कही आपने उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया सही अब उसने अपना एक दूसरा डिब्बा खोला अब उसमें से अकीदे की गलत बातें आपको बताना शुरू की क्योंकि अब वो आपसे पास हो गया ठीक है अवाम के पास स्कैनर कौन सा होता है बहुत जबरदस्त होता है कुछ चीजें इनके मन को भाए तो उसको अपना उस्ताद बना लिया अब इसकी बात नहीं लगती है अब उससे मुसलसल सुनना शुरू करता है फिर वो कुछ चीजें ऐसी बताना शुरू करता है जो गलत होती है ऐसे बातिल का यही तरीका होता है पहले मोटी मोटी मोटी मोटी चीजें लोगों के सामने रखो उससे उनका दिल जीतो उसके बाद में उनको ऐसी चीजें बताओ जो आंख बंद करके वो मान ले इसको याद रखिए लिहाज इमाम मालिक ने बात कही है एक ऐसे बिदात में से जो भी आदमी होता है वो ऐसे ही करता है पहले वो सही बात सही बात सही बात बताता है जब वो सारे लोग उससे मुतमिन हो जाते हैं फिर गलत बातों का कोटला खोलता है और उसमें से निकालना शुरू करता है तो ऐसे लोगों की बात ना सुने तजर्बाकार जब किसी के बारे में आपको इशारा दें हाँ ये ठीक है इतफला मसले में इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज जब से ये लो भाई आप ये लो चाहिए तो उसके पास जाए आपने बताया अपनी जिंदगी और उलमा अपनी जिंदगी में बताते हैं हर इलाके के उलमा जो वाकई बड़े उलमा होते हैं तजर्बाकार होते हैं जानकार होते हैं वो लोगों को यूं ही नहीं छोड़ते वो बताते इनसे लिहाजा आज जो आज आलमी सतह पर ये एक वबा फैली हुई है कि हम हर एक से आबाद वो कहते हैं हर एक से सही बात लेना चाहिए सही बात लेने के लेना चाहिए या बात वो कहते हैं कि देखो सही बात लेता हूँ गलत बात छोड़ देता हूँ ये बोलने के अतबार से बहुत अच्छी बात है जाहिर बात है सही बात लेना चाहिए गलत बात छोड़ना चाहिए लेकिन आप क्या इसकी सलाहियत रखते हो कि हर बोलने वाले की बात में आप सही और गलत का फर्क करो क्या आपके पास ये सलाहित है तो हाँ तो इस सलायत के लिए आपके पास इल्म और गहरी समझ होना चाहिए हाँ तो फिर उसका बस मतलब क्या ढूंढ रहा तो इल्म हासिल करने के लिए ये लो जो चीज आपके पास नहीं है आप उसके लिए चेक कैसे करोगे आपके पास बुनियादी तौर पर इल्म ही नहीं है और फिर आप लोगों को सुन रहे हो और आप कह रहे हो कि हम चेक करके लेंगे कैसे तो उसकी बुनियाद क्या होगी बात सही लग रही क्या हाँ मेरे को तो सही लग रही है तो सही आदमी ऐसा कर यानी मुझको अगर सही लग रही है तो सही क्या ये बुनियाद है दीन का इन हासिल करने के लिए नहीं हो सकता है एक बात आपको सही लगे हो गलत हो हो सकता है एक बात आपको गलत लगे हो सही लेकिन जब एक इंसान किसी से सुनते सुनते सुनते उससे मोहब्बत करने लगता है उसकी इज्जत उसके दिल में बैठ जाती है उसका फैन होके घूमना शुरू करता है अब उसके बाद कोई बड़े से बड़ा आलिम भी बोले वो आदमी सही नहीं है तो आपको क्या मालूम आप जलते हो आपका बयान हम नहीं सुनते उसका सुनते ना आप जलती आपके अंदर है ये तो आलिम लोग ऐसे ही बोलते हैं जो चाहते कि लोग उन्हीं के गुलाम बने रहे इसका मत सुनो उसका मत सुनो उसका मत सुनो वो फलाना इंजीनियर है वो फलाना ऐसा है फलाना टीचर है इनकी मत सुनो ये आप इनका ठेका ले रखा है लोगों ने इनकी मोनोपोली है हो सकता है कोई आलिम इस वजह से भी करे कि लोग उसके गुलाम बने रहे लेकिन सारे के सारे ऐसे नहीं है और रसूल भी ये नहीं है वैसे ही जैसे कोई बड़ा डॉक्टर कहे देखो भाई जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है जो वाकई डिग्री जिसके पास है उसी से तुम दवाई करो कोई भी आदमी पुड़िया खोल के दवा दे उससे मत खाया करो देखो ये पैसे कमाना चाहता ये चाहता कि सारा पैसा इसकी जेब से जाए तो बोले अरे अरे आदमी कोई भी आके आपको कहे भाई लो ये दवा खाओ और सस्ते में लो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं मत लिया करो ऐसा अगर कोई डॉक्टर ऐसा बताए आप क्या सोचते सोच नहीं सोचते ऐसा वहां बड़े अकलमंद है बोले नहीं बराबर देखो हाँ इतने लोग निकले मार्केट के अंदर वो सस्ते में दवा देते लेकिन वो एक्सपायर्ड होती है अपने को नहीं समझता है इसलिए एकदम ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाना वहां बदगुमानी डॉक्टर से नहीं करते हैं लेकिन से ये दीन ही का मामला ऐसा है कि इसमें जो चाहे अपनी राय से तुम भी बोले हर आदमी इसमें आके घुस सकता है कुछ भी बोल सकता है सारी दुनिया पे छा सकता है दिलों पे छा सकता है ये गलत है बिला शुभा कुछ लोग ऐसे होते जो खुद आलिम नहीं होते लेकिन दीन के बाद मामलात में कुछ सीख लेते हैं और उनको देखते हैं और उनको इजाजत देते हैं कि तुम इतने महदूद दायरे में लोगों की तरबियत कर सकते हो और वो लोग भी इस काबिल होते हैं और एतम के लायक होते हैं कि वो अपने दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे वो मछली की तरह होते हैं वो पानी से बाहर नहीं निकलते हैं वो जमीन पे नहीं चलते बराबर उसी दायरे में जो उलमा ने बताया चलते हैं लेकिन बाकी लोग ऐसे नहीं होते हैं आलिम के मातहत एक गैर आलिम और आलिम के मातहत नहीं लेकिन एक आधा आलिम बाद लोग आधे आलिम होते हैं आधा आलिम का मतलब आधा भाई गिलास भरा हुआ है आधा तो आधा क्या है आलिम भी तो आधा आलिम का मतलब आधा जाहिल भी तो है ना तो आप वैसा क्यों नहीं देख रहे हो आप आधे आलिम की बात मान रहे हो आप आधे जाहिल की भी मान रहे ना लेकिन लोग ही नहीं देखते तो बोलते तो फलाने की बात बहुत अच्छी लगती है बाद वो शोहरत पाने के बाद ऐसे मामला में भी बोलना शुरू करता है जिसमें उसको चुप रहना फर्ज उसके लिए क्यों इसलिए कि लोग इस देखते हैं कि फलान आदमी है फलान टॉपिक पे बहुत अच्छा बोला अब वो सारे मामले आप में उससे पूछने लगते सिर्फ उसके मामले में नहीं कि लोगों को क्या मालूम इसको क्या मालूम और क्या नहीं मालूम ये बोलता है कि मतलब इसको सर मालूम होगा ये एक मकरूजा लोगों के जहनों में होता है लिहाजा वो सारी चीजों में उससे पूछना शुरू करते हैं उसकी तरबियत नहीं हुई होती है उसकी तरबियत नहीं हुई होती है और वो इंसान चूंकि इस मैदान में शुरू ही सिर्फ इसलिए आता है कि उसके दिल में आता है खुदा आलिम देखो कैसा फेमस है खुदा आलिम देखो स्टेज पे खड़े के कैसा बोलता है लोग इतनी बड़ी भीड़ जो सामने बैठी हुई सब के साथ ताले हो जा रहे हैं उसके दिल के अंदर वो जज्बा पैदा होता है काश के मैं भी ऐसा होता है तो पहले दिन से ही गलत बात उसके दिल में होती है अब जो शोहरत का जज्बा उसमें होता है अब लोग जब पूछते हैं तो सबके सामने क्या बोले नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं मालूम तो उसको डर ये होता है जब मैं ऐसा ज्यादा बोलूंगा तो लोग क्या करेंगे अब आओ फिफ्टी में अगर बोल नहीं मालूम तो लोग क्या होगी फिर पिराटो बात तो नहीं मालूम तो लोगों के सामने मेरा मरतबा घट जाएगा क्योंकि काम मरतबे के लिए और की खिदमत और दीन की खिदमत के लिए भी वजह क्या है लोगों की निगाह में बड़ा बनना है लोगों की निगाह में चमकना है जब यही वजह हो तो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसकी पर्सनैलिटी डैमेज होती है क्या तो फिर कैसा करता है अब मेरे ख्याल से ऐसा है शायद ऐसा है हो सकता है इसमें इख्तलाफ है ना हाँ। आपको जैसा लगता है चलो ऐसा भी है ऐसा भी है फिर वो ऐसे जुमले देने लग जवाब देने लगता है जो पोलिटिकली करेक्ट हो जो डिप्लोमेटिक आंसर हो ये पकड़ में ना आए और लोगों को सही जवाब नहीं देता है जो गुमराह हो जाते हैं लिहाजा नौजवानों के लिए क्योंकि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले कौन है हमारे बुजुर्ग तो बोलते वही पुराना हमारे मोबाइल अच्छा है इसमें दबा दबा के जो है फोन लगता है ये नए नए तुम्हारे ट्रैक्टर जो है हम लोग दबा के कई नंबर लग जाते हैं उल्टा उल्टा कुछ भी लग जाता है वो इस्तेमाल भी नहीं कर रहे स्मार्टफोन के जरिए से आज जहाँ नब्बे की चीजें पैदा हो रही हैं वहां नुकसान भी हो रहा है वह नुकसान भी हो रहा है और नौजवान गुमराह के जरिए अगर आप देखिए बाकी सारी चीजें छोड़ के आप एक्सीडेंट भी देखिए इससे कितने हो रहे हैं वो भी देखिए स्मार्टफोन के जरिए से एक आदमी फोन पे टिक टिक टिक टिक कर रहा है और जाके सीधा गड़े में कोई आदमी पुल से नीचे कोई आदमी गाड़ी के सामने कोई आदमी दीवार को जाके टकरा रहा है कोई पोल से टकरा रहा है क्या नहीं इतना बिजी कितना जिंदगी में किसी को बिजी देखे आप मुक्ति में ऐसी गफलत इतना दीवाने लोग हो गए अब उसके जरिए से क्या आ रहा है यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप और सारे मैसेजेस अलम गलम सब लोग सबको भेज रहे हैं बगैर तहकीक के आम हो रहा है ये इनका जरिया बन गया है ये गलत है ये गुमराही का जरिया है तो तीसरी चीज ये है कि नौजवान दीन का गहरा इम हासिल करें नंबर एक नंबर दो जो जो मुफ्तिन है पुख्ता है उनके मातहत दीन का गहरा इल्म इसलिए कि सच्चे इल्म इंसान आधा सुना आधा नहीं सुना थोड़ा समझा थोड़ा नहीं समझा अगर ऐसा होगा तो गलती करेगा वो दो चीजों को गलत मदद कर देगा वो दो चीजों को मिक्स कर देगा और दीन के मामला अलग होते हैं जैसे आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक नौजवान आया पूछा रोजी की हालत में बीज से चिमट सकते हैं कि नहीं बोधगनार कर सकते हैं कि नहीं कहा हाँ नहीं मना किया और एक बुजुर्ग आए उम्र दराज पूछा तो कहा कि हाँ इजाजत है आप देखिए दोनों का मामला अलग है एक साहब आया पूछा अल्लाह के रसूल अगर मैं सफर में होता हूँ मैं आमतौर से रोजे रखता हूँ तो क्या मैं सफर में रोजा रखू आपने कहा अगर तुम चाहो तो रखो लेकिन दूसरे शख्स को देखा आपने कि लोग उसके ऊपर बिल्कुल हाँ पर्दा किए हुए हैं और लोग उसकी खिदमत कर रहे हैं और पड़ा हुआ एकदम तो आपने फरमाया रोजा सफर में रोजा रखना नेकी नहीं है आप देखिए कि आकाम ऐसे हो गए कहीं एक चीज ऐसी होती तो दूसरी जगह अलग होती है अब उसने एक तरफ से एक चीज पढ़ ली बाकी दलीलें नहीं देखी बाकी मामला नहीं देखे अब वो एक चीज को बुनियाद बना के लोगों के सामने बयान करता है सच्ची इनका नुकसान ही होता है कि इंसान एक ऐसे आदमी को ऐसा फतवा देता है जो उसके लिए नहीं है तो ऐसे ही है जैसे दुनिया मामला में सब तो ग्रह ये लो मैंने भी खाया था मेरा भी सही हो गया तू खा ले तू गया तो परवा नहीं आप बताए किसी आदमी का सर दर्द हो रहा हो तो क्या एक ही गोली सबके लिए चलती है पेट दुख रहा ना पेट ही तो है लिखा कहाँ जाएगी मुंह से पेट नहीं जाएगी सही हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो ज्यादा से ज्यादा आईसीयू में जाएगा ना और क्या होगा और उससे ज्यादा कुछ हो तो सीधा कबर में जाएगा करते हैं ना नहीं करते आदमी सोचते भाई ये मेरी तुम्हारे भी हो सकता है पेट डूबने की कोई और वजह सर डूबने की कोई और वजह हो सकता है एसिडिटी की वजह से दर्द हो रहा है माइग्रेन भी हो सकता है चश्मा लगा हो सकता है चेकअप करना पड़ सकता है किस वजह से आपका सर दर्द हो रहा है हमको नहीं आप अच्छे डॉक्टर से मिलिए वो देखेगा बताएगा वाकई चेक करने के बाद मालूम पड़ेगा वजह क्या है आप देखिए सर दर्द और पेट दर्द का यह हाल है दीन में भी तो ऐसा हो सकता है कि हर मामले का मसला मतलब, इसका जवाब हर आदमी के लिए अलग हो सकता है हम लोग क्या करते हैं अब जो आदमी नीम हकीम होता हो क्या करता है कंप्यूटर उसके पास है और इंटरनेट उसके पास है ज्यादा इंटरनेट पे फतवा किसी न किसी आलिम का किसी न किसी के बारे में उठा के लाके उसको दे देता है हालांकि हर आदमी का मामला अलग होता है हर आदमी का मामला अलग होता है एक आलिम उसके तमाम चीज़ों को देखकर बताता है कि इसके लिए फुला चीज़ क्या है इसका जवाब क्या है सारी तफसीलात देखने के बाद उसको फतवा दिया जाता है तो सबसे इल्म यह है कि एक इंसान यहाँ वहां के फतवे कॉपी करना शुरू करे यहाँ वहां की बातें अधूरी उसको सीखना शुरू करे सुनना शुरू करे और उसको सब पे लागू करना शुरू करे ये नहीं होना नौजवान आज ये गलती कर रहे हैं बहुत सारे फिर आपने वो आलिम की क्या जरूरत है आलिम से पूछने की जरूरत क्या है गए इंटरनेट पर कहा को उनको फोन करके जगह दिखा उनको फोन करके क्यों जगह है भाई ढूंढो मिला ढूंढने से सब मिलता है कहा गूगल में और बाज अवकात ऐसा फतवा आदमी देता है जो उसके लिए नहीं था वो केस अलग था उसके लिए अलग इजाजत थी इसके लिए अलग इजाजत है इसके लिए हल अलग है उसके लिए हल अलग है आप कहेंगे दीन तो एक ही है दीन एक है लेकिन लोग अलग हैं इसलिए दीन हर इंसान के लिए है बताइए आपने पढ़ा दीन के पांच रुकन हैं तो उनमें से क्या है जक़ात भी है हज भी है और रोज़ा भी है नमाज भी है अब आप फायदा को नमाज पढ़ाएं हामिला जो एकदम परेशानी में मुसीबत में है या बीमार है उसको रोज़ा भी रखवाएं और जो गरीब है मार पीट के जगात उसके लिए जंग करें उनके खिलाफ और अबू बकर सिद्दीक की दलील दें उन्होंने भी जंग की थी तो मैं भी जंग करूंगा और फिर आप हज के लिए ऐसों को भेजें उनके पास ताकत नहीं जबरदस्ती कहे तुम पे भी फर्ज है कर्जा लेके जाओ क्यों दीन का रुक है भाई सही है नहीं इस्लाम में ये चीजें हैं लेकिन जो गरीब है उसके लिए अलग है अब दीन एक ही है ना हाइजर नमाज सब पे फर्ज है ना हायदा पे भी है नहीं है रोजा सब पे है ना लेकिन बूढ़ा आदमी जो रोजा रखने की ताकत नहीं रखता है ऐसा बीमार जो अच्छा नहीं होने वाला बजाहिर उसके लिए रोजा है नहीं पी दिया है क्यों ऐसा हुआ आप सबके लिए दिन एक है ना नहीं हो उसके लिए अलग होकर तूने सब देखा तूने उसका हुक्म किधर लगा दिया इधर तो को नौजवानों में ये नुकसान है गहरा इल्म नहीं है और अधूरे इल्म के साथ में जल्दी से जल्दी मुक्ति बनने की कोशिश करना है ये नुकसान है नौजवान कामयाब नौजवान कौन है जो दीन के सच्चे इल्म के बजाय गहरा इल्म हासिल करे और उलमा की मातहती इख्तियार करे अयूब सत्यारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये पहली और दूसरी सदी हिजरी के आलिम है कहते हैं इन मिन सआदतिल हदति वल अजमी इमाम अल्लाह रिकाई ने शाह कसूर एतकाद अहल व जमा में इसको जिक्र किया कहते हैं एक नौजवान और एक नया इंसान जो इस्लाम में दाखिल हुआ या आजमी आजमी इंसान उसके लिए सादत की चीज़ ये है कि अल्लाह ताला उसके लिए कामयाबी की चीज़ ये है कि अल्लाह ताला अहल सुन्नत के किसी आलिम के साथ उसको जोड़ दें अल्लाह ताला उसको इस चीज़ की तोफ़ी अदा फरमाए कि वो अहल सुन्नत में अहल सुन्नत आप कुछ और ना समझे अहल सुन्ना का मतलब वो है कि सुन्नत वाले कुरान और सुन्नत के पाबंद महज लेबल लगाने से कोई अहल सुन्नत हो जाता है नहीं वाकई सुन्नत वाले जो आप बनकर के किसी के पीछे नहीं करते बल्कि सुन्नत के मुताबिक फैसले करते हैं तो अल्लाह ताला उस नौजवान को अहल सुन्नत के किसी आलिम की तोफीक दे दे ये उसकी कामयाबी की अलामत है अच्छा आलिम मिलना ये इंसान की कामयाबी और उसकी सदत में नहीं तो आदमी पूरी जिंदगी भर गुमराही में रहेगा और मालूम ही नहीं पड़ेगा यकीन रहेगा कि आलिम साहब ने बोला है ना बस कर दे रहा हूँ एक आदमी गुमराह हो सकता है लिहाजा ये चीज़ बहुत अहम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं है समय पर क्या होगा आपने फरमाया इन अल्लाह अल्लाह ताला इल्म ऐसे नहीं उठाएगा कि लोगों से छीन ले बंदों से छीन ले इनका उठाने का तरीका अल्लाह का ये नहीं एक इंसान के दिल ही से आयतें और हदीसें गायब कर दी जाएं वो दीन को जानने के बाद अचानक ऐसा हो जाए कि उसको कुछ भी नहीं मालूम अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता है तो अल्लाह ताला इनको ऐसे नहीं उठाएगा अपने बंदों से कि उनसे छीन ले बल्कि अल्लाह ताला लाकिन वलाकिन यकबिजुल इल्म बिकब्दिल उलमा वो भी जो हदीस आई है कि इल्म उठा लिया जाएगा यूरफा इल्म कि इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत आम होगी ने का मतलब ये है इल्म उठाए जाने का कि अल्लाह ताला एक एक करके उलमा को उठा लेगा और फिर लोग जहालत की बातें करने लगेंगे और यही बातें आम होगी और जहालत आम हो जाएगी और इल्म उठा लिया जाएगा यानी उलमा कम होते जाएंगे तो कहा कि वलाकिन इल्म को अल्लाह उठाएगा उलमा के उठाने से देखिए किताबों में इल्म आप सोचेंगे कि किताबें तो बाकी रहेंगी किताबों को समझ के जवाब देना भी इल्म चाहता है आपके पास बुखारी आपके पास मुस्लिम क्या वो काफी है नहीं उसको समझने के लिए समझाने वाला चीज यही वजह है कि उलमा ने अरबी जानने वाले उलमा ने भी बुखारी की मुस्लिम की और हदीस की किताबों की शुरुआत लिखी है क्यों लिखी अरबी आता नहीं था उन लोगों को और उनको पढ़ने वालों को अरबी नहीं आता है अरबी जुबान में अरबी हदीस की शरह क्यों लिखी क्या अरबी जानना काफी नहीं है कुरान को आप देखिए कुरान की तफासी लिखी गई है क्यों खाली अरबी जानने से कुरान आदमी समझ लेगा हर हर लफ्ज मालूम है कुरान का क्या मतलब है समझ लेगा नहीं उसको आलिम के समझाने की जरूरत है आलिम उसको समझाता है तब जाके समझ में आता है ये जो कुलूब में अल्लाह रबुल आलमीन तकवा के सबक अल्लाह ताला जो इल्म डालता है वो भी खैर अल्लाह की तरफ से मयूरी दिल्ला खैर दीन अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसको दीन की गहरी समझ देता है तो ये अल्लाह की तरफ से लोगों को तोफीक मिलती है फहम की लिहाजा आदमी को क्या और सालों साल आदमी जब उलमा की माफियाती में रहकर सीखता है उसके पास एक मलका पैदा हो जाता है कुत पैदा हो जाती है हक और बातिल में फर्क करने की यूं ही एक दो चार से पढ़ लेने से आयतें पढ़ लेने से नहीं आ जाता लिहाजा उलमा जब उठा लिए जाएंगे तब जाके क्या होगा इल्म उठा लिया जाएगा हत्ता इदा लम आलिमन इत्तखद الناس رؤوسا جهالا आप फरमाते हैं कि जब आलिम बाकी नहीं रहेंगे तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे अपना रईस या सर हेड किसको बनाएंगे जाहिलों को जब आलिमी नहीं है तो फिर आधे आलिम कोई आदमी ऐसे ही किसी को हेड बनाता है कि सबसे नादान आदमी को नहीं हमें से सबसे ज्यादा समझदार तो उनमें जो लोग होंगे आलिम तो नहीं होगा लेकिन उनमें जो आदमी ऐसा होगा जिसको वो समझेंगे कि जानकार है उनको क्या बनाएंगे अपना रईस फसो इलू पर अब तो बगैर और उनसे सवाल पूछें और वो बगैर इल्म के फतवा देंगे वबल्लू व अबल्लू खुद भी गुमराह होंगे दूसरों को भी गुमराह करेंगे मालूम ये हुआ ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है इस हदीस से मालूम होता है कि लोगों की गुमराही का असल सबक बाद के दौर में ये होगा कि वो ओलमा से महरूम हो जाएंगे लेकिन ये जो गुमराही है क्या सारे ओलमा खत्म होने के बाद ही आती है नहीं असल वजह गुमराही की क्या है सारे उलमा का खत्म होना नहीं उलमा की बजाय ऐसे लोगों से पूछना ऐसे लोगों से इल्म हासिल करना जिनके पास इल्म नहीं है जो दलील की बजाय अपनी राय से हदीस में ये भी आया है वो अपनी राय से फतवे देंगे तो खुद भी गुमराह होंगे दूसरों को भी गुमराह करेंगे लिहाजा उलमा की बजाय जो दलाल की बुनियाद पर जवाब देते हैं आदमी ऐसे लोगों के पीछे चलने लगे और ऐसे लोगों से इल्म हासिल करने लगे जो मुजरद कुरान सुन्नत से आज़ाद होकर अपनी अकल चलाकर लोगों को जवाब दे ऐसे लोगों के पीछे चलने लगेंगे आज भी गुमराह होंगे उसके लिए वो दोहराने की जरूरत नहीं कि अगर सारे डॉक्टर खत्म हो जाए लोग अपने तरफ से गलत दवा देने लगे तो लोगों को हलाकत होगी आज भी अगर आदमी ऐसे आदमी के पास जाए जो डॉक्टर नहीं आज भी हलाक होगा भाई आज भी अगर आलिम से आज़ाद होकर एक नीम जाहिल और नीम आलिम और ऐसा आदमी जो तकवा और इल्म की सिफत से महरूम हो ऐसे आदमी से इल्म हासिल करेगा वो खुद भी गुमराह होगा इसको भी गुमराह करेगा लिहाजा कामयाबी नौजवान की उम्र में कामयाबी के लिए एक चीज ये भी जरूरी है कि एक तरफ नौजवान के मातहत हो और दो वो दीन के अंदर पुख्तगी हासिल करे अधूरे इल्म पर बनात न करे अधूरा इल्म कब होता है जब एक नौजवान नौजवानी की उम्र में शुरू शुरू में जज्बा होता है उलमा के दुरूस में जा रहा है उलमा की खिताबात सुन रहा है जुमा के खुतबे में हाँ बिल्कुल अजान से पहले जाके बैठ रहा है एकदम जल्दी शुरू शुरू में जज्बा होता है फिर कुछ दुरूस में बैठ के कुछ चीजें सीख लेता है उसके बाद उसको ऐसा लगता है आ गया आ गया मुझको सब आ गया अब वो ये समझता है अब जाने की जरूरत नहीं है अब जाने की जरूरत नहीं है अब मैं समझ चुका हूं अब मुझको जितना समझा है उसी में मैं शपथ करके जवाब निकाल सकता हूँ जैसे लोग लॉटरी निकालते हैं उसी को मैं प्रोसेस करके जवाब हासिल कर सकता हूँ जैसे कि मुझको मालूम है अब वो अपनी जितनी मालूम उसकी पोटली में होती है उसी पर बुनियाद रखकर नए मसायल हल करना शुरू करता है वो समझता है तोहहीद के बाद लेता है फुला चीज हलाल है ऐसा होगा तो ऐसा भी हलाल होगा वो खुद करने लगता है या फिर लोगों से मीटिंग करके डिस्कस करके व्हाट्सएप पे आज ऐसे ही होता है आज नौजवानों का ऐप क्या है एक बड़ी बुराई है कि आपके पास फोन अगर इसलिए है कि आप व्हाट्सएप पे आपस में बहस करें आपके पास फोन इसलिए भी तो है कि आप डायरेक्ट आलिम साहब को पूछ के मसला हल कर लें लेकिन वो ये काम तो करते हैं लेकिन वो नहीं करते आपस में डिस्कस करके नतीजे पे पहुंचने की कोशिश तो करते हैं चाहे उसके लिए डिबेट की नौबत आ जाए चाहे दूसरे पर लानत करने और झगड़ने की नौबत आ जाए वो चल जाएगा लेकिन जो छोटा काम है आसान काम है पांच मिनट के अंदर फोन लगाया हम लोगों ने एक चीज़ में सलाह ये हुआ है मौलवी ये ऐसा बोल रहे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं सही बात इसमें क्या है आलमी साहब बताए देखो ये सही है ये गलत खत्म दलील क्या है ये दलील है उसमें क्या होता है क्रेडिट हमको नहीं आलिम को मिलता है प्रॉब्लम क्या है उसमें डिबेट का इंजॉयमेंट नहीं है उसमें जीत और हार का मतलब नहीं है उसमें दूसरे को नीचा दिखा के उसके सर पे पांव रख के ऊपर तरक्की करने की सूरतें नहीं है उसमें क्या है तू भी छोटा मैं भी छोटा आलिम बड़ा उसमें ऐसा है लेकिन इसमें कैसा है देखेंगे तू छोटा क्या मैं छोटा तू जीता क्या मैं जीता तो उसमें नफ्स की तस्कीन है ये छुपा हुआ ऐब है जिसको अक्सर हम समझ नहीं पाते नहीं नहीं मेरे दिल में ऐसा नहीं है खामोश है है नहीं है जो आदमी खुद से पैसे ज्यादा करे और उलमा से कम पूछे ये उसकी गुमराही की अलामत यानी गुमराही की अलामत लिहाजा आदमी को चाहिए कि वो उलमा से पूछे जब किसी दूसरे आदमी से पूछना जो अकल की बुनियाद पर फैसला दे समझे इसको ऐसे लोग गुमराह क्यों होंगे वो लोग ऐसे लोगों से पूछेंगे जो बगैर इल्म के फतवा देंगे तो अगर बगैर इल्म के जवाब निकालना है तो दूसरे के पास जाने की क्या जरूरत है खुद भी ऐसा करे तो गुमराह हो जाएगा क्योंकि वो भी तो गुमराह हुआ ना तो अगर आप खुद भी ऐसा करने लगे आप भी बुरा हो जाएंगे कब करेंगे आप ऐसा जब आपके पास अधूरा इल्म हो लिहाजा पुख्ता इल्म हासिल करें नौजवानों के लिए बहुत अहम चीज़ है इस दौर की और इसीलिए आप देखिए जिहाद के मसायल हुकूमत के मसायल जो कि ऐसे मसायल हैं जिन पर एक आमी आदमी को बोलने की जरूरत ही नहीं है आमी आदमी को इस पर बोलने की जरूरत नहीं है इस पर वो लोग बोले वो लोग फैसला करें जो दीन का इल्म गहराई के साथ रखते हैं और जो सियासी उमूर को जानते हैं जो आलमी हालात को जानते हैं उन्हीं को उस पर बोलना चाहिए लेकिन आज के इस दौर में आप देखेंगे कि हर पैदल आदमी इस बारे में बोलने लगा है क्यों बोलने का शौक है और उसका नुकसान हो रहा है उसका नुकसान हो रहा है राय बदल रही है ऐसा होना चाहिए वो पुरानी गवर्नमेंट है उसने ऐसा करना चाहिए नहीं कर रही गलत है हम उसके खिलाफ है हम और उठाएंगे फिर फेसबुक पे एक पेज बनाया कितने लोग हमारे साथ हैं बताओ रजिस्टर कर रहे हैं एक दो चार हजार पचास हजार चालीस हजार लाख बीस लाख फिर चलो आके हम लोग एक जगह जमा होंगे जितने भी फेसबुक पे है मैसेज डाला एक जगह जमा होंगे जमा होंगे रेवोल्यूशन शुरू हुकूमतें टूट जाती है अरब स्प्रिंग तो हुकूमतें खराब हो जाती हैं नुकसान तो मिले इसमें खैर नहीं वो आदमी ऐसे मामला में बोले जिसको उस मामले के बारे में इल्म नहीं है नुकसान होते हैं सियासी मसायल में वही लोग बोले जो जानकार है बोलने का शौक होना एक और चीज है बोलने के लिए इल्म होना एक और चीज है चार डॉक्टर बैठ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशन करें या दवा का इलाज करें सिर्फ क्या करना पड़ेगा इनका सर्जरी करें या फिर दवा करें कौन सी सर्जरी मुनासिब है कौन सा ये भी जाके बैठा मेरी दारी है कि ऐसा हो रहा है चलेगा आदमी सोचिए कोई आदमी डॉक्टर आपको मामूली डॉक्टर क्लिनिक उसका है अगर पाँव में बच्चे के कुछ जख्म है उसको कुछ करना है आप अंदर जाते डॉक्टर साहब तो आप बाहर जाओ क्यों उसको मालूम है ये अंदर रहेगा ये काम में नुकसान पैदा करेगा करने नहीं देगा जरा ऐसा करो हाँ जरा ऐसा से कांटा निकालो अरे ऐसा कैसा कर रहे मेरी राय ये करो मैं आऊँ बीच में बीच में आएगा तो ये और कभी चक्कर आके गिर गया तो ये पेशेंट अलग है एक और हो जाएगा तो डॉक्टर क्या कहता है आप बाहर जाओ कैसे जाता चुपचाप बाहर ऐसे नहीं होता पैसे दे रहा मैं फ्री में कर रहे क्या मेरा रिश्तेदार है वो आपका कौन है मैं रहूंगा यहाँ पे नहीं करता करता वहां पे वहाँ बराबर लेकिन ओलमर बैठ के अगर कुछ बात कर रहे हो किसी मसले पर मैं भी आना चाहता हूँ मैं भी उम्मती हूँ हाँ, मेरा भी मामला है उलमा की क्या मोनापोली है क्या इसमें वहाँ बराबर तीन का ही एक मामला ऐसा है जिसे फुटबॉल का मामला हो गया हर आदमी आके उसमें अपनी तरफ से कुछ करना चाहता है याद रखें जो काम ओलमा का है ओलमा को सौंपे जो काम हुक्काम का है हुक्काम को सोचे जो आपका काम है वो आप करें नौजवान मैं इसलिए इतना तफ्तीस इसको समझा रहा हूँ साथ में ये बिगाड़ दीन के नाम पर ये बेदीनी ये सारा दीन के नाम पे हो रहा है भड़काना नौजवानों को देखो कैसा हो रहा है अरब में सही नहीं हो रहा है अपने कुछ करना चाहिए क्या करना चाहिए अपने कुछ करना चाहिए मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कुछ करना चाहिए क्या करना चाहिए घर में क्या करना चाहिए पहले वो देखें अक्सर वो लोग जो आलमी रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं उनके घरों में रेवोल्यूशन नहीं ला सकते तो अगर घर में ला सकता है तो बाहर की बात समझ में आती करना नहीं है लेकिन तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तू घर में इसलाह कर सके तो आलम की इसलाह करना चाहता सही नहीं तो नौजवानों के जहन में कहता है पूरी दुनिया बदल दूंगा मैं ऐसा कहता होगा तो जब वो जवानी की उम्र में कदम रखता है अपने अतराफ की दुनिया देखता है हुकूमत ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट फाइनेंशियल मामला ये उसके जहन में सियासत बहुत होती है नौजवानों में सियासत बल्कि दीन के मामला में भी वो तब्दीली चाहता है ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए उसके जहन में बहुत होता है ऐसा न करें आप बाहर की तब्दीली से पहले अंदर की तब्दीली पर ध्यान दें आप अपने को बदलने की सोचे पूरी दुनिया को नहीं वो ओलमा बताएंगे बदलना तो बदलो अपने दिल से नहीं जैसा वो बताएंगे वैसा करना चाहिए लिहाजा ये एक बहुत अहम चीज है जो जवानी की उम्र में याद रखना चाहिए तीसरी चीज क्या थी वो क्या इंकलाब लाना सब होने के बाद अखीर में अगर याद रहे तो फायदा क्या है क्या चीज थी जो आप बोले हो हा? दीन में गहरी समझ और उलमा से आजादी सही नहीं उलमा की मात है इस दौर का अहम तरीन फरीजा ये है बल्कि आप इसको पहला फरीजा तोहीद के बाद कहें तो भी सही है बल्कि बाद एतबार से तोहीद की इतला से पहले आ जाता है फायरम अन्ना हो ला इल्मी नहीं होगा तो तोहीद की असात सही होगी इल्मी सही नहीं आदमी का तोहीद ही गलत होगी इल्म के बगैर इसलिए अल्लाह ने पहले आए थे कौन सी नाजिल की तोहीद की इजमाली तोहीद उसमें है लेकिन असल क्या है उसमें एक बड़ा बिस्म कर लगे इनके बारे में नाजिल की इल्म बहुत है कदम के बारे में तालीम के बारे में पढ़ने के बारे में अल्लाह ने पांच आयतें नाजिल की सुबह अदालत में क्यों इसलिए कि इंसान की सोच को सही करता है सही इल इंसान की सोच को सही करता है जब सोच सही हो जाती है तो आदमी के बोलने में अल्फाज उसके जज्बात उसके अमान सही हो जाते हैं अगर इल्म गलत हो जाए तो आदमी के आदमी के काफिला बिगड़ता है उसकी सोच बिगड़ती है उसके अखबार बिगड़ते हैं उसके अरमान बिगड़ते हैं जिंदगी बिगड़ती है और न सिर्फ उसकी बल्कि पूरा समाज बिगड़ता है जैसा इल बहुत जरूरी है तो बहुत बड़ा फरीद है इसको याद रखिए आइए आगे बढ़ते हैं नंबर चार नौजवानों के लिए चौथी चीज ये जरूरी है कि वो अपने आप को इस्लामी रंग में ढालें इस्लामी सांचे में ढालें सिर्फ अकीदे और कौल की हद तक नहीं बल्कि अमली जिंदगी में भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी को अपने लिए उसवा और नमूना बनाए वो सलब की जिंदगी को देखकर उनके नक्शे कदम पर चले वो यहूद और नसारा और फासदीन और फुज्जार और दुनियादार किस्म के लोगों को अपने लिए रहनुमा बनाए आज नौजवानों को एक तबका खास तौर पर वो जो दीन से दूर है उसकी जिंदगी में आपको दिखाई देगा आज उनके आइडियल कौन है फिल्म स्टार स्पोर्ट्समैन सियासतदान दुनियादार लोग इस तरह के जो लोग हैं वो उनको देख कर चलते हैं खुदा ने ऐसे कपड़े पहने नया फैशन आया मैं भी वैसे ही करूँ चाहे फिर बाल छोटी ही क्यों ना डालनी पड़े छोटी भी डालेगा दाढ़ी मौली साहब बोल बोल के थक गए इतना कुछ में मौली साहब जो देखा दाढ़ी रखा है मौली साहब को क्या मालूम है पुराने फिल्म स्टार को देख के रखा है आप सोचिए कितनी बड़ी जिल्लत की चीज है कि एक इंसान एक काम सुन्नत की वजह से न करे लेकिन ऐसे इंसान की वजह से करे जो दीन का मुखालिफ है जो नंगा नाच नाचता वैसे आदमी की वजह से रख सकता है लेकिन नबी की वजह से नहीं रख सकता है तो इस आदमी की निकाह में नबी की सुन्नत और उस आदमी की सुन्नत का कितना बड़ा फर्क सुन्नत का मतलब तरीका होता है तो किसकी सुन्नत पर है वो फुटबॉल प्लेयर की सुन्नत पर है क्योंकि उसने दाढ़ी रखा तो इसने भी रखा वरना मौली साहब बोल बोल के थक है भाई रखो रखो रखो दाढ़ी रखो नहीं रखता है लेकिन जब उसने देखा कि मेरा प्लेयर है उसने दाढ़ी रखा है जो मुझको पसंद है मेरा फिल्मदार है उसने रखा है तो फिर उसको देखकर इसने भी बतौर फैशन रखा है वो रख सकता है सुनत के तौर पर नहीं आप सोचिए नबी के तरीके के तौर पर नहीं हालांकि शरी एतबार में हुक्म दाढ़ी का देखा जाए तो मैं सुन्नत नहीं है नबी का तरीका है लेकिन नबी का अमल भी उस पर है वो वाजिब है ऐसी एक चीज नहीं कई चीजें बता सकता पजामा पतलून पूरे गांव की सफाई का डिपार्टमेंट उसका इतना लंबा कि टखनों से नीचे बल्कि कदमों से नीचे लेकिन नया फैशन आ गया है घुटनों के नीचे मौलवी साहब बोलते थे भाई ये सही नहीं है और टखनों से नीचे होगा तो जहन में जाएगा बोले बोले साहब लोग क्या बोलते हैं तुम्हारे पास कपड़े कम पड़ गए क्या कोई बोलता है छोटे भाई का पजामा पहन के आया गया छोटे भाई का जीन्स पहन के आया गया कपड़े खत्म हो गए क्या तो लोगों में हमारी जो हम लोग मानदार लोग हैं लोगों के सामने हम लोग कैसे दिखाई देते हैं फकीर मिस्किन गरीब इसलिए हम ऐसा पर्स पहनते हैं और थोड़ी थोड़ी ये कोई जहानों में थोड़ी चला जाएगा आदमी उसके लिए क्या करता है तावीरात लेकिन फैशन बदला फैशन बदल के क्या हो गया अब लोग ऊपर वाला पहनने लगे हैं टखनों से ऊपर बल्कि घुटनों के करीब करें बल्कि फैशन तो उससे भी ऊपर तरक्की करके चला गया है हाँ पहले लोग पुलिस को देखते थे हंसते थे कहते देखिए हाँ चड्डी पहन के बाहर बढ़ा है लेकिन आज अच्छे अच्छे लोग चड्डी पहन के घूम रहे हैं और उसको फैशन समझ के कर रहे हैं तो किसी को लगता नहीं कोई हंसता नहीं उसको देखिए देखो बच्चा आया कोई देखता है हंसता है नहीं फैशन है फैशन अगर नंगेपन का हो तो वो भी फैशन है फैशन इंग्लिश वर्ड है ना भाई फैशन क्या है इंग्लिश इंग्लैंड से आया हो बाहर से जो भी आया कितना भी गंदा हो वो क्या है पाक है हाँ। वो इंग्लिश में अगर हो तो सही है एकदम सही है अरबी हो तो अरब उर्दू में हो तो इसका दम नहीं इंग्लिश में हो एकदम टिप टॉप तो चड्डी भी पहने तो अच्छा है वो आज ये हाल तो आज देखिए वही आदमी जो टहने से नीचे पहनता था आलिम के बोलने पर हबीब से दिखाने पर भी उसका पजामा पैंट उसका टहनों के ऊपर ले जाता लेकिन अब जैसी फैशन बदला अब टहनों से क्या वो पिंडलियों तक पहनने लग गया क्यों फैशन बदला इसकी निगाह में फैशन नबी का मकाम लिए हुए है इसकी निगाह में फैशन शरीय बन चुका है हमारे नौजवान ऐसे नहीं होना चाहिए बेगैरत नहीं होना चाहिए हमारे घर अब कंपनी में जा रहा है खुला जगह जा रहा है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है पहनने के लिए नीचे पहनना चाहिए नहीं तो तेरा पैटर्न इख्तियार कर तो दिन पर इख्तियार कर अगर कोई तुझसे कहे ऐसा क्यों तुम पजामा ऊपर पहनते ऐसा क्यों तुम पैंट ऊपर पहनते ठीक तो है भाई पैंट पहनना पड़ रहा वहां पे क्यों तुम ऊपर पहनते हो टनों से नीचे क्यों नहीं पहनते हो गरीब हो क्या इतना बड़ा पेमेंट पैकेज तुम्हारा फिर भी क्यों कम पहनते हो आप उसको ये बताने की जरूरत नहीं है हमारे इस्लाम में देखो ना क्या करना आप नहीं पहन सकते मना जहनम में जाऊंगा मैं करके पहन रहा हूँ तो पहनता नीचे था आपको तो जरूरत नहीं बता रही आप बोलो मुझको ये पसंद है चड्डी पहनने वाला क्या बोल रहा है चोटी डालने वाला क्या बोल रहा है बनियन और उसका बस चले तो अंडरवेयर पे आ जाए वो ये बोलता है मेरे को पसंद नहीं है ये ऐसा मुझे पसंद है आई लाइक इट इंग्लिश का है ना फिर English this is my life हाँ ऐसा कुछ बोल के दिस इज माई लाइफ मेरी जिंदगी है मैं जो तय करूँ आई लाइक इट या नाइकी का डू इट ये अगर कोई आदमी बोल दे ये इतना सेक्रेड है ये इतना मुकद्दस जुमला है कि अगर कोई आदमी बोल दे मुझे पसंद है कुछ आपत्ति है हिंदी में भी कभी कभी बोल सकता है कोई प्रॉब्लम है I like it if you like it then it so अगर वो आदमी वैसे बोले in my religion I can do this मेरे दीन में बात कम्युनल आदमी दीन का जैसे ही नाम लेके आदमी कुछ करता है फौरन वो कम्युनल हो जाता है आप ऐसा ना बोले आप उसको क्या वजह दें सबसे मुकद्दस जो आज दुनिया में चल रही है सबसे ज्यादा सेक्रेट जिसको टच करना का मतलब प्राइवेसी जिसको कहते हैं पर्सनल फ्रीडम जिसको कहते हैं सबसे ज्यादा मुकदस आज मेरी मर्जी मैं ऊपर पहनू घुटनों तक पहनू टकनों तक पहनू कहीं तक भी पहनू मैं पजामा पहनू लुंगी पहन के आऊ मेरी मर्जी अगर आप ऐसा कहें तो कोई आदमी आप पे ऑब्जेक्शन दे सकता है नहीं क्योंकि फ्रीडम रिलीजन से बड़ा बन गया है तो आप फ्रीडम को इस्तेमाल कीजिए मैं मेरी मर्जी मैं ऐसा पहनता हूँ मैं ऐसा करता हूँ मैं ये करता हूँ मेरी मर्जी मुझे पसंद है तो रोजा क्यों रखता है क्यों रोजा रखता हमारे इस्लाम में बहुत कम्युनल है नमाज पांच टन की पढ़ता है तो पाबंदी से हाँ हमारे इस्लाम में बहुत ज्यादा कट्टरपंथी है लेकिन आप उसको बदल के कहें आ, मुझे पीस ऑफ माइंड के लिए पढ़ना है आप फिर तो मैं भी पढ़ा तो चलेगा वो पूछेगा आज देखिए क्या अजीब दुनिया है कि आप अगर वह कहें कि भाई मैं नमाज पढ़ता हूं मैं मेंटल पीस के लिए पढ़ता हूं तो आप बुरे नहीं लेकिन मेरे दीन में है तो आप बुरे हैं अगर उल्टा भी लटक जाए आदमी तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं ऑफिस के अंदर क्यों वो योगा के नाम पर करे अगर योगा लफ्ज आ गया चल जाएगा लेकिन वही आदमी इस्लाम के नाम पे मान लीजिए उल्टा सीधा खड़ा होता है तो वो नहीं चलेगा आज जो लोगों के जहन इतने कबिल हो चुके हैं ये अच्छी बात नहीं है ये अच्छी बात नहीं लिहाजा आप ऑफिस के बाद नौजवान ये गलती करते हैं हमारे इस्लाम में ऐसा है हम लोग ये करना हमारे लिए जरूरी है तो वो दीन का नाम आप मत लो वहां ये आपके जॉब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि आपको सब उस निगाह से देखेंगे ये बहुत रिलीजियस है बहुत धार्मिक का मतलब एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट का मतलब टेररिस्ट आज ये बन चुका है आप ऐसा मत कीजिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हमारे इस्लाम में ऐसा मत कीजिए आप क्या करें मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसा किया रोजा रखा ना मेरा पेट साफ हो जाता है मेरे मेंटली एकदम उसको क्लीन लगता है बॉडी के लिए भी अच्छा है टॉक्सिक सब निकल जाते बॉडी से मेरे आप बताओ उसको आपकी वजह बताने की जरूरत नहीं है कि आप अल्लाह को राजी करने के लिए कि आप लोगों को बोलते रोजा क्यों रखा अल्लाह की रिजा के लिए रखा वही बोलते आप नहीं बोलने की जरूरत क्या है याद रखिए आपको बहुत ही धार्मिक अपने आप को साबित करने की जरूरत है आपकी कंपनी में मत कीजिए आप या आपके फायदे का नहीं नुकसान का है आप बोलो मेरे को पसंद है मेरे को बहुत अच्छा लगता है मजा आप बोले बहुत मजा आता रोजा रखे बहुत मजा आता है नमाज पढ़ते मजा आता है ठीक कर तो उसको मजा आता है तो तेरी जो मर्जी होता है तो आज आदमी का दिन ये बन चुका है नौजवानों को चाहिए कि दिन से चले और उस तर्ज हयात को छोड़ें जो फासकीन और बेदीन लोगों का शियार है कान में सुराख कर लिया कान में सुराख करके उसमें बाली पहन ली क्यों लड़की है ने ने हाँ पॉप सिंगर ने पहना है फुला ने क्रिकेट के प्लेयर ने पहना है तो मैं भी पहनूंगा ये फैशन हमारा नहीं है वो औरतों का है कान में पहना है नाक में भी पहन और पहनने को तो अजीब बात ये है लोग लो जबानों में पहन रहे भाई क्या है मुसीबत फैशन है क्या है जबान में सुराग करके उसमें कुछ इस तरह से डाल क्या है स्किन में यहाँ डाल रहा यहाँ डाल रहा क्या क्या फैशन लोग निकाल रहे नाक में ऐसा भी पहन रहे उसको शर्म नहीं आती उसको वो लगता नहीं कुछ देखिए दूसरी कौमें कुछ भी करें उनकी मर्जी उनके लिए फ्रीडम रिलीजन है हमारे लिए नहीं हमारा रिलीजन इस्लाम है इस्लाम फ्रीडम नहीं है इस्लाम पाबंदी है अल्लाह की पाबंदी और जहालत से फ्रीडम इस्लाम क्या है जहालत से फ्रीडम और इल्म की पाबंदी इसका नाम इस्लाम है तो हम वो फैशन इख्तियार करें औरतों में भी आप देखिए लड़कियों में बच्चियों में ऐसे तंग लिबास क्यों टेलर के पास जाके बोलते वो पुरानी फिल्म में वो पुरानी ने पहनी थी ना वैसा चाहिए मुझे क्या उमहतुलमिन हमारे अपने दौर के अहले इल्म से खातन तालीम सालिहा इनका उस बात लिए नहीं है तो फिल्म एक्ट्रेस के कपड़े पहनती तो फिल्म देख के वो कहता नाकरी वैसा तू पहन के बाहर हाँ, जाएगी लोगों के सामने और पर्दा में पर्दा क्यों नहीं उसको अपने लिए बहुत ये समझती है वो तो पाबंदी में लेकिन जरा मिलती है मॉडर्न ही है रोशन ख्याल भी ये टीवी पे जैसा देखती है वैसे कपड़े पहनती है जैसा मेकअप टीवी वाले करते हैं वैसा मेकअप ये करती है जैसा वो जीती है वैसा ये भी जीती है जैसा वो मरेगी वैसी ये मरेगी जैसी वो हशर में जमा होगी वैसे हशर में जमा होगी इसके लिए तैयार है जैसा जिएगी वैसा मरेगी और जैसा मरेगी वैसा उठाई जाएगी किनके साथ चाहती है फिर एक्ट्रेस के साथ कयामत के दिन जमा होना चाहती तू स्पोर्ट्समैन और नाचने गाने वालों के साथ जमा होना चाहता है फिर वैसा जी जैसी जिंदगी वैसा अंजाम तेरा होगा जैसी दुनिया में क्या चाहता है नहीं शरत को देख सहाबा को देख उनके तौर तरीकों को अपना जिंदगी के मामला में मुशाबहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और असलाब की हमारी होना चाहिए फासिक और फाजिर कौमों की नहीं इसको याद रखें अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में बेहतरीन उसवा मौजूद है तुम्हारे नमूना रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो आपके तौर तरीकों को अपनाओ साहब अब आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में जूतियां उतार दी साहबा ने भी उतार दी आपने अंगूठी पहनी साहबा ने भी पहनी आपने उतार के फेंक दी साहबा ने भी उतार के फेंक दी साहबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपनी जिंदगी में तौर तरीके अपनाते थे हत्ता के बाद साहबा जैसे उम्र उनका हाल ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर के दौरान पुराने पेड़ के नीचे आराम किया था वो भी अगर वहां से गुजरते वो भी उसी पेड़ के नीचे आराम करते हमारे नबी ने इसको चुना हम भी उसको चुनते हैं नबी की पसंद मेरी पसंद यहाँ तक कि आपको एक साहब ने देखा कि आप बर्तन में कद्दू तलाश कर रहे हैं कोई मसल नहीं अच्छा कहते जिसके बाद से मैंने घर में जब भी मेरे घर में सालन बना मैंने अपने घर वालों को कहा उसमें डालो कद्दू डालो उसके अंदर जरूरी है नहीं लेकिन आप देखिए उनकी जिंदगी सी थी वो जानते थे कि हमारे नबी को जो पसंद है वो अल्लाह को नापसंद नहीं होगा लिहाजा जो हमारे नबी की पसंद है वो हमारी हमारी पसंद है ये मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को अपनी पसंद बनाए जैसा आप खाते थे जैसा आप चलते फिरते थे जैसा आप बात करते थे जैसा आप जीते थे जैसा आपकी जिंदगी के मामला थे नौजवान उसका अपना है ये नहीं कि नाचने गाने वालों को अपना रहनुमा बनाकर उनकी तरह तौर तरीके अपनाए नहीं हम नहीं करते हम नहीं करते हमारी दीनी गैरत हमारी ईमानी गैरत इसमें हमारे लिए माने हैं कि हम ऐसा करें हम नहीं करते बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ जता के कहा है आपने मना किया है आपने फरमाया लई तमिन्ना मन तशब्बह बिगैरिना ला तशब्बहु बिल यहूद वला बिल नसारा इमाम तिमिदी ने इसको रिवायत किया और ये हसन दर्जे की रिवायत है आपने फरमाया लई कमिन्ना मन तशब्बह बिगैरिना जो हमारे गैर का की मुशावत इख्तियार करे जो हमारे गैर का तौर तरीका अपनाए जो हमारे गैर की तरह जिए वह हमें से तुम यहूद का तरीका मत अपनाओ नसारा का तरीका मत अपनाओ साफ अल्फाज यहूद भी नहीं नसारा भी नहीं चाहे वो माजी के हों या हाल के हों चाहे वो माजी में हो जैसे बनी इसराइल ने जो जो गलतियां की बचो उनकी तरह मत चलो नसारा ने जो गुरु किया जो भी बुराइयां उनमें आई बिदात उनमें आई उनका तरीका मत अपनाओ न दीन के मामले में न दुनिया के मामले में उनका तौर तरीका उनका है हम उनकी तरह न रहें हम उनकी तरह न चलें हमारा अपना तरीका है हमारे नबी का तरीका है और इन कुन तुम तो नौजवान देखिए खाने पीने के तरीके आप देखिए सब लोग खड़े होके खाते भी खड़े होके खाता है खड़े होके खाते बाएं हाथ से खाता है फैशन बन गया है बाएं हाथ से खाना खड़े होके खाना क्या बुरा है इसके बल्कि उनकी तरह जीन्स पहनने की वजह से पेशाब भी खड़े होकर करना पड़ रहा है क्या मुसीबत है इतनी टाइट कि बैठे तो आवाज सुनाई दे फट गई ज्यादा टाइट कौन बोला तेरे भाई कौन तुझको कैद में जेल में जाना पसंद करेगा नहीं तो चौबीस घंटे जेल में है ना तेरा जीन्स पैंट तेरे लिए क्या है ये तू बैठ नहीं सकता तो नहीं ना बैठ नहीं सकते बैठ नहीं सकते खड़े होकर पेशाब कर क्यों क्यों गुलामी जहनी गुलामी से निकलिए जहनी गुलामी से निकलिए वो कौम जहनी गुलामी में मुबतला नहीं है वो ध्यान को जो पसंद हम पहनेंगे हमको जो पसंद है हम वैसा जिएंगे हमारी मर्जी आप उनकी जहनी गुलामी मुबतला हो वो जैसा पहनेंगे वैसा हम पहनेंगे वो जैसे चलेंगे फिरेंगे वैसा हम चलेंगे फिरेंगे वो जो कहते हैं तैयार करेंगे आप ये कहो मुझको जो पसंद है मैं पहनूंगा पजामा तो पजामा मेरी मर्जी भाई मेरी सहूलत इसमें है मैं ऐसा जीऊंगा आप क्यों ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है आप क्यों उनकी तरह आप कम से कम इसमें उनकी इतना करते अगर करना ही चाहते हो तो मेरे को जो पसंद है मैं करूंगा आप इसको नहीं लिए आप उनका फैशन ले लिए तो लिहाजा ऐसा फैशन इसीलिए है कि बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते क्यों नहीं पढ़ते पाकी का एहतमाम नहीं हो पाता है ठीक है आदमी जीन पैंट पहनना मना नहीं आदमी अगर ऐसी पहन रहा है जिससे पेशाब पकाना बेसिक नींद से उसकी सही ढंग से कर पा रहा है और पाकी में वो रुकावट नहीं है अगर वो पाकी में उसकी रुकावट नहीं तब तो जायज है अगर ऐसी जीन्स है कि जो उसकी पाकी के लिए खतरा है और पाक नहीं रह पाता उसकी वजह से तो हराम है समझ रहे बात इसलिए कि वसायल पर वही हुक्म लगता है जो मकासद का होता है अगर ये चीज उसकी पाकी में रुकावट है और पाक नहीं रह पाता है उसके लिए जायज नहीं है उसके लिए जायज नहीं है सोचिए कितने नौजवान है बोले नमाज नहीं पढ़ता क्यों तारत नहीं हो पाती क्यों इसलिए ये फैशन ऐसा अख्तियार कर रखा है कि मैं जब पेजाब करता हूँ तो कतरे रह जाते हैं या धो नहीं सकता मैं धोता हूँ तो खड़े होकर धोना पड़ता है ये लिखी है बेटा खड़े होकर धोना पड़ता है खड़े होकर धोने से क्या होता है कपड़ों पर पूरा उड़ जाता है मेरे कपड़े साफ नहीं है तो मैं नमाज नहीं आ सकता कौन बोला तुझको फर्क किया है हुकूमत ने तेरे ऊपर किसने फर्क किया है शैतान ने फर्क किया है किसने क्यों कर रहा है उनका फैसला क्यों तू इख्तियार करेगा तो तेरा तरीका अपना तेरे के पास जा तेरे पैसे हैं तेरा कपड़ा है बोल भाई मेरे को इतना चाहिए बैठने के लिए आना चाहिए नहीं बोल सकता जब नहीं भी आया चले गए लेकिन उनके साथ दिखना चाहिए कौन बोला पैसा खर्च करके गुनागार होना कौन सिखाया लिहाजा दूसरी कौमों का दावा करेगा उनको नमाज नहीं है भाई वो पेशाब करते तो धोते भी नहीं है उनका बस चले तो पाकाना भी ना धोए उनकी मर्जी उनकी मर्जी भाई उनका उनका अपना मामला है तेरा मामला उनकी तरह नहीं है ना तुझको पाक रहना है तू क्यों उनका फैशन अपना रहा है उन्होंने कंसिडर नहीं किया कि मेरे इस तरह के लिबास की वजह से उसको नमाज का मसला होगा उनको तो नमाज ही नहीं है वो तो नमाज ही नहीं पढ़ते भाई और बाकी भी उनका मसला नहीं है तेरा है ना तो तू तो अपने हिसाब से तू पहन याद रखिए इसको इसको याद रखिए तो दूसरों के तौर तरीके न अपनाए ये भी नौजवानों के लिए जरूरी कामयाब नौजवान वो है जो दूसरी कौमों की और करंट फैशन के का जहनी तौर पर गुलाम ना वो पाबंद नहीं है आज के फैशन का पाबंद नहीं है हाँ आज की टेक्नोलॉजी आप इख्तियार करें बहुत अच्छी बात है फैशन नहीं फैशन जाते आते रहता पुराने फैशन कहीं निकलते वापस आते फिर से वापस आते घूम के लोग पहनते हो लिहाजा आप उसके पाबंद न बने आप सुन्नत इख्तियार करें और जहाँ इस्लाम ने आज़ादी दी है भाई लिबास पहनने में आज़ादी है तुम पहनो जहाँ जहाँ गुंजाइश है वहाँ आप शरीर को मलबूज रख के लिबास अख्तियार करें खाने पीने में आप दीन का तरीका अख्तियार करें सलाम दुआ में आप दीन का तरीका अख्तियार करें ये नहीं कि good morning good afternoon good evening good night hello how do you do सलाम दुआ नहीं है इस्लाम में सलाम सफर में bye bye goodbye welcome और इस तरह की चीज़ क्या जरूरत है आपको इस पे हराम का बकवा लगे ना लगे एक अलग मसला है लेकिन आपके लिए जो तालीमत इस्लाम की हैं आप सबक में विदा करते वक्त क्या करें सबक से कोई लौटे तो आप क्या कहें आप घर में दाखिल हो तो क्या कहें घर से बाहर जाएं तो क्या करें आप ये सारी चीज़ें करें आप अपना दीन इख्तियार करें दूसरी कौमों का तरीका इख्तियार न करें अल्लाह तला हम सबको समझता फरमाएं ये कुछ बातें थी जो नौजवानों से मुतालिक थी मजीद और कुछ बातें हैं इन अगले दुरुस्त में हम इनका इनके बारे में देखेंगे अकुल अभी इन अजान होगी और आठ पचास पर जमात खड़ी होगी जो अगर आप वजू करना चाहते हैं और वजू करके वापस